का बहुत बड़ा करम और एहसान है महीना बहुत मुबारक है महीना बहुत मुबारक है हज का महीना जगह बहुत मुबारक है अल्लाह का घर और गम जिस नस्बत पर जमा है वो नस्बत भी बहुत मुबारक है यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की प्यारी प्यारी बातों को सुनना और आज की रात और भी ज्यादा मुबारक है इसलिए कि जुमा की रात है बहुत सारी चीजें जमा है दुआ करें अल्लाह हमको भी मुबारक बताए और मुसलमान को भी मुबारक होता है जिससे गुना माफ हो जाए अल्लाह उसके दर्जा को बुलंद फरमाए तो मेरे क्या दुआ करें अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए कहो आमीन अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए और जैसे अल्लाह ने हमको यहाँ जमा किया दुआ करें अल्लाह हमको जन्नत फिरदौस में भी जमा फरमाए आप बुरा न माने तो आगे आगे आ जाए पीछे बहुत सारे लोग जमा खाने के बाहर भी बैठे और, और आगे माशा अल्लाह तला आप सबके जमा होने को कबूल ये नवसारी तक तो कई मरतबा आना हुआ नौसारी तक कई मरतबा आना हुआ लेकिन ये अंदर पांच किलोमीटर रखा है कौन सा गाँव बताया मोलखरा मोलखरा गाँव में ये पहली मरतबा पहली मरतबा आना हुआ है अल्लाह तला ये सारे को कबूल करना है पहली मरतबा कहीं जाता हूँ ना तो थोड़ा टेंशन तो मेरे को भी होता है पहली मरतबा कहीं जाता हूँ तो टेंशन मेरे को होता है अब आप लोग इस तरह चुप चुप बैठेंगे तो और ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है डर लगता है कि मालूम की कुछ कड़वा बोलूंगा उठ के चला जाएगा तो मेरा बयान कौन सुनेगा और पहली मतलब अगर कहीं जाता हूँ तो खाना भी बहुत कम खाता हूँ कहा गया सुलेमान भाई सुलेमान भाई जिसके घर पर खाना खाया हमने यहाँ पे अपना बीवी के हैं कोई बात आदर किसी किसी को बीवी के नहीं अच्छा लगता है मेरे प्यारों में यहाँ आया हूँ ये जुमा की रात है मैं आपसे तीन काम लेने के लिए आया हूँ आप मेरा साथ दोगे तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएंगे कितने काम मैंने सब ऐसा ऐसा ऐसा बोलोगे तो नहीं चलेगा कितने काम मेरा साथ दोगे इंशाला सबसे पहला काम मैं चाहता हूँ कि मैं और आप अल्लाह का जिक्र करेंगे करेंगे ना अल्लाह का जिक्र करेंगे अब यहाँ पहली मतलब आया अब मालूम नहीं जिक्र करने की यहाँ आदत है या नहीं है हाँ इसलिए कि बहुत से लोगों का हाल ऐसा होता है कि जिक्र करने का वक्त आता है तो उनको शर्म आती है उनको होटले पे बैठ के गाली देना हो तो शर्म नहीं आती है उसको किसी की गिबत करता हो पीठ पीछे बुराई करना हो तो शर्म नहीं आती उसको किसी पर सोमत लगाना हो तो शर्म नहीं आती शर्म आती तो खुदा के घर में अल्लाह का नाम लेना हो तो शर्म आती ये हमारा ईमान बहुत कमजोर है मेरे प्यार तो बहुत कमजोर है हमारा ईमान जहाँ बोलना है वहाँ हम न बोले जहाँ न बोलना था वहाँ हम बहुत ज्यादा बोल पड़े अल्लाह हमें ईमान की कदर करने की तोहफी का है तो मेरे प्यार मेरा पहला काम तो ये है कि हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह करेंगे करेंगे बोलो जिक्र करेंगे इंशाल्लाह और मैं मैं चाहता हूँ कि इस सब बुलंद आवाज से जिक्र करें इसलिए अगर आपकी आवाज बहुत धीम धीम हुई ना तो मैं भी सदा कर रहा हूँ खाना खा लिया हूँ मैं कोई टेंशन नहीं चला रहा हूँ हाँ, खाना नहीं खा रहे ना तो फिर जरा टेंशन होता है छोटा मोटा बयान किया फिर बाद में वो सुलेमन भाई ने खाना नहीं खिलाया तो रात को बीवी तो पूछने वाली थी पूरी रात भूखा भूखा सोना पड़ता है लेकिन आप तो अलहमदुल्ला खाना वाला भी खा लिया और आप मेरा साथ दोगे तो बात आगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे हाँ अल्लाह का जिक्र करेंगे अरे साथ में बोलो ना अल्लाह का जिक्र करेंगे मेरी जुबान पर अल्लाह आप सबकी जुबान पर भी और जिक्र करने से पहले ये बात बता दो कि अगर आज हम लोग यहाँ बैठे जिक्र करेंगे हमारे आपका ताजदार मदीना मोहम्मद वसल्लम का पक्का वादा है और हमारे नबी के वादे से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई वादा नहीं होगा हमारे आका फरमाते जिक्र कर ले हमारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह फरमाते सब बैठ के जिक्र कर लो अल्लाह उठने से पहले चार इनामा तुमको नसीब कर देगा अभी हम लोग यहाँ रहे हम जमा है बोलो जिक्र करेंगे इंशाल्लाह और जब हम पक्के हैं जिक्र करने में तो नबी का वादा तो उससे भी ज्यादा पक्का है और हमारे आका वर्मा के जिक्र कर ले तेरे यहाँ उठने से पहले और घर जाने से पहले अल्लाह तुझे चार इनामत दे देगा तो ये चार इनामत देने को कौन कौन तैयार है मेरे प्यार बताओ चार इनामत देने सब तैयार है ना अच्छा कौन से चार इनाम मिलेंगे जिक्र तो हम करेंगे इंशाला लेकिन हमें कौन कौन से चार इनाम मिलेंगे तो सुनो हमारे आका क्या फरमाते मुस्लिम शरीफ की रिवायत से हमारे आका क्या फरमाते रसूल النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله मलाइका حفظهم कह पहला इनाम बताया पहला इनाम हमारे आका ने फरमाया जब कुछ लोग जिक्र करने जमा हो जाए सबसे पहला इनाम बोलो सबसे क्या इनाम मिलेगा हमारे आका ने फरमाया जब कुछ लोग जिक्र करने जमा हो जाए सबसे पहला इनाम अल्लाह चारों तरफ फरिश्तों को खड़ा कर देते हैं आज मूलधरा में ये मस्जिद के करीब अल्लाह चारों तरफ फरिश्तों को खड़ा करते और फरिश्ते कहते सुबह करते रहिए मकसद की दुआ करता रहूंगा तो हम तो जिक्र करेंगे घर जाके सो जाएंगे लेकिन फरिश्ते सुबह तक हमारे लिए मकफिरत की दुआ ये बहना जब समझ गए आज परिचय हमारे लिए मफिरत की दुआ कब तक करेंगे अल्लाह फरमाते मेरे बंदे तू जिक्र करता जा आज मैं अपनी रहमत तेरे कदमों पर निछावर करता जाऊंगा तो जिक्र करता जाओ मैं रहमत तुझ पर उतारता जाऊंगा कितने इनाम हो गए दो और तीसरा इनाम सुनना न गलत आने ये मुस्तकीना अल्लाह के रसूल फरमा दे अल्लाह का जिक्र कर ले तेरे दिल में चैन सुकून इसमें मिलेगा जो सुकून तुझे कहीं न मिला होगा वो अल्लाह के नाम में नसीब होगा कितने कितने इनाम हो गए अरे बोलो तो कितने इनाम हो गए तीन इनाम हो गए ना आज फरिश्ते हमको गिरेंगे बोलो इंशाला और सुबह तक मफिनत की दुआ करेंगे नंबर दो अल्लाह की रहमत सर से लेकर पाओ तक निछावर होगी इंशाला और नंबर तीन हमारे दिल में चैन सुकून इतमान नसीब होगा कितने इनाम हो गए तीन और चौथा इनाम तो इतना प्यारा हमारे नबी ने क्या फरमाया जिक्र कर ले हमारे नबी ने फरमा जिक्र कर ले चौथा इनाम क्या अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह का जिक्र कर ले तू अल्लाह अल्लाह जमीन पर करता जाएगा अल्लाह आसमान पर और आज तेरा नाम लेता जाएगा आज जुमा की रात है हम लोग अल्लाह अल्लाह करें आज आसमान पर अल्लाह हमारा नाम लेगा अरे हम जमीन पर फर्श पर गुनेगारों के बीच में अल्लाह अल्लाह करेंगे अल्लाह हर्ष पर मासूमों के बीच में हमारा नाम लेगा अल्लाह तला खुद फरमाते गुरोनी कहा तो फरमाते मुझे याद कर ले मैं तुझे भी याद करूंगा तू जमीन पर याद कर ले मैं आसमान पर याद करूंगा तू फर्श पर याद कर ले मैं आज पर याद करूंगा तू गुनेगारों के बीच में मेरा नाम ले ले मैं मासूमों के बीच में तेरा नाम लूंगा तो जिक्र करने पर कितने इनामात बुरा मजमा साहब ने बोले कितने इनामात गिरना और सुबह तक मफिरत की दुआ करना नंबर दो अल्लाह की रहमतों का निछावर होना नंबर तीन दिल में चैन सुकून इतमान का मिलना और नंबर चार हम जमीन पर अल्लाह अल्लाह करेंगे अल्लाह आसमान पर हमारा नाम लेगा ये चारी इनामत याद रहेंगे इन तो चलो फिर शुरू करें जिक्र शुरू करेगी सोच कर जिक्र करेगी अल्लाह की कसम आज जिक्र करता जाऊंगा चारों इनामत लेता जाऊंगा इंशाल्लाह वैसा करेंगे जिक्र करेंगे इंशाल्लाह मेरा साथ दोगे ना मैं शुरू करें मेरी जुबान पर अल्लाह पूरा मजमा साथ में बोले हम सबकी जुबान पर भी الله لا إله إلا मोहब्बत होती वरना अल्लाह को कोई जरूरत नहीं पर अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं अल्लाह ने जिक्र करवाया इसका मतलब है कि अल्लाह को हमसे मोहब्बत है और दुआ करो मरते दम भी हमारी जुबान पर उसी का नाम हो कह दो हम एक काम हो गया अल्लाह का जिक्र हो गया अब हम सब लेकर आका ताजार मदीना पर जरूर पड़ेगी जरूर जुमा की रात है जुमा की रात है पम्पन जरूर पड़ेगा मेरे साथ में जरूर पम्पन पड़ेगा माशाला मेरी जुबान पर मोहम्मद साथ में बोलो मेरी जुबान पर मोहम्मद आप जितने बैठे सबकी जुबान पर सल्लाह हो जरूर मैं जरूर एक इनाम आपको बताऊंगा एक इनाम बताऊंगा लेकिन ये इनाम मिल गया तो मेरा आपका पूरी उम्मत का बेड़ा पार हो जाएगा लेकिन पहले बताओ जरूर पढ़ेंगे तो मैं बताऊँ जरूर पढ़ेंगे निशान सब पढ़ेंगे जरूर निशान धरा कर लो एक वादा कर लो रात को सोऊंगा नहीं जब तक दो सौ मरतबा जरूर न पढ़ होगा कौन कौन आज तेज के लिए तैयार हो जाता है माशा तैयार इंशाला आज मैं कहता हूँ लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं सल्लाह वाली वसलम सल्लाह वाली वसलम सल्लाह वाली वसलम चलते चलते फिरते फिरते उठते उठते बैठते बैठते दो सौ मरतबा तो इतना जल्दी हो जाएगा कि तेरा दिल अंदर से कहेगा बहुत कम पड़ा चलो पाँच सौ मरतबा पढ़ लो पढ़ेंगे इंशाला अरे बोलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसे कहा हमारे जवानों को मैं देखता हूँ मुझे मौजरा के बारे में कुछ नहीं मालूम और अल्लाह की कसम किसी को कुछ पूछा भी नहीं और पूछने की जरूरत भी नहीं लेकिन अक्सर हमारे जवानों को देखा जाता है वो कई वोटे पर बाहर बैठे रहते मालूम नहीं मौजरा में बैठते कि नहीं बैठते बैठते हाँ, कोई बोलेगा नहीं घबराएगा काल में बोल के फंसू भाई लेकिन बैठते हमारा हमारा जवान बाहर बैठता है कोई काम धंधा कुछ भी नहीं मैं कहता चल भाई कुछ नहीं कर कम से कम बैठे बैठे सल्लाह वाली वसलम सल्लाह वाली वसलम आज मैं आपको बताता हूँ अल्लाह की कसम अगर जरूर कबूल हो जाएगा ना तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा मैंने कहा ना जरूर पाक बहुत फायदे हैं बहुत बड़ा बताया है लेकिन मैं तो सिर्फ कितने फायदे बताऊंगा जितना खाया उतना बताऊंगा आज सब बता दूंगा तुम्हें कोई बोलता बुलाएगा नहीं ये मैं अठारह साल से बयान करता हूँ पहली मरतबा मोलतरा की जमीन को देखा हूँ अठारह साल में किसी ने याद नहीं किया अगर अभी ज्यादा सब बता दूंगा तो कहेंगे मौलाना को बुलाने की जरूरत ही क्या है इसलिए ही फायदा बताओ लेकिन बहुत प्यारा फायदा देखो देखो देखो फायदा सुनना पढ़ेंगे जरूर पढ़ेंगे इंशाला हाँ, मेरे मेरे मेरे प्यारो सुनना सबसे बड़ी दौलत ये अल्लाह हमसे राजी हो जाए बोलो बोलो सबसे बड़ी दौलत क्या है अल्लाह हमसे फिर बोलो साथ में सबसे बड़ी दौलत का अल्लाह नबे अगर आप कुरान उठाओ ना कुरान कुरान में दसवें पारे में कौन से पारे में दसवें पारे में अल्लाह खुद फरमाते जो हाफिज ने कुरान है वो जानते होंगे जो हुफा जी ज्ञान है कि दसवें पारे में अल्लाह तला खुद फरमाते हैं अल्लाह खुद फरमाते हैं मेरे बंदे मैं तुझसे राजी हो गया जहाँ इससे बढ़कर कोई कामयाबी नहीं होगी अरे इससे बढ़कर क्या चाहिए अल्लाह खुद कहते हुए मेरा बंदा मैं तुझसे राजी हो गया पढ़ने के लिए बोलो इससे पढ़कर कोई कामयाबी होगी कौन से पारे में दसवें पारे में अल्लाह ने क्या फरमाया यहाँ बहुत सारे हाफिज बैठे हो गए अरे बोलो ना है ना दसवें पारे में अल्लाह ने क्या फरमाया अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मैं तुझसे राजी हो जाऊं इससे बढ़कर कोई नेमत है बोलो इससे बढ़कर कोई नहमत साथ में बोलो अल्लाह राजी हो जाए इससे बढ़कर कोई नहमत है नहीं अल्लाह राजी हो जाए इससे बढ़कर कोई कामयाबी ही नहीं अल्लाह राजी हो जाए इससे बढ़कर कोई ही नहीं अल्लाह राजी हो जाए इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं दुआ करो अल्लाह हमसे थे एक मरतबा हमारे आका मोहम्मद वसल्लम ने सारे सहाबा को कहा सारे सहाबा को कहा अल्लाह को राजी करो अल्लाह को राजी करो अल्लाह को राजी करो वो सहाबा किराम ने पूछा हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान अल्लाह को राजी कैसे करे पर अल्लाह को राजी कैसे करे और राजी जो है राजी राजी के माने अल्लाह को खुश करना और अल्लाह को अब हम लोगों का हाल कैसा है मालूम है हम लोग कभी खुश कभी नाराज सही बताओ ऐसा होता कि नहीं होता अरे बोलो ना हाँ तो बोलो ऐसा होगा अभी जगह घर में सारे बोलता वाले बैठे अभी इस वक्त आप लोग मेरे से बहुत खुश हो इसीलिए तो बैठे हो मेरे से बहुत खुश हो लेकिन अगर मैं कोई कल बात कहूंगा कल की बात कहूंगा तो क्या कहेंगे मालूम बाहर निकल के कहेंगे सबको बोला नहीं कल भी कहेंगे सबको कभी नहीं बोला बात समझ में आई तो मेरे से राजी और फिर थोड़ी देर में मेरे से इस दुनिया में चलता है अरे दुनिया में चलता है कभी कोई किसी से राजी और कुछ चीज के बाद क्या हो जाता है नाराज हो जाता है अरे सर पता हूँ जो शादी वाले मैं उनसे पूछता हूँ तुम कभी कभी घर में जाओ तो तुम्हारी बीवी शादी के लिए आपकी तो शादी हुई है अब तो इमाम होना इमाम डरता है इसीलिए सब मौत रहते हैं अरे हम घर में कभी कभी जाओ तो कभी दीदी हमसे इतनी खुश हाँ कभी कभी हमारी दीदी इतनी बोल तुम्हारा सही कह रहा हूँ कभी कभी दीदी इतनी बोल आपको नहीं समझ में आ तो मेरे साथ तो होता ही होगा कभी कभी दीदी इतनी बोल क्या बोल हाँ, तुम कितनी देर हो गई मैंने खाना भी नहीं खाया और जब तक तुम खाना नहीं खाओ मैं खाना नहीं खाओ और तुमको शुगर है तुम परहेजी करोगे मैं भी परहेजी करूंगी अरे हमको लगता हो बेटी है कि कोई भूल है कि कोई झंडा क्या है और कभी कभी आप घर में जाओ इतना घोड़ा चढ़ा के बैठी है सही भी मुहान सही भी नहीं मैं थोड़ा चढ़ा के बैठेगी हम पूछेंगे क्या हुआ तो अरे मुंह चढ़ा चढ़ा के बोलेगी ये तेरी माँ तेरी माँ मुझे मरती भी नहीं और मेरे को तो मरने भी नहीं यही दुनिया है मेरे दोस्तों कभी राजी और कभी अभी चौबीस घंटे पहले हमारे बगैर खाना खाने को तैयार नहीं थी अभी तो हमको मारने के ऊपर तैयार हो गई होता है हम लोगों का यह हाल है कभी राजी और कभी लेकिन सुनो दरूद पाक में वो पावर के हमारे दो सुहान दो नबी जो बात मैं आपको बता रहा हूँ मेरा समझ लो इतना पावर है दरूद पाक में हमारे नबी ने क्या फरमाया हमारे मदीना हमारे मदीना मोहम्मद फरमाया मेरे अल्लाह को राजी करो अल्लाह को राजी करो के ने पूछा कैसे राजी करे ने का कैसे राजी करे हमारे आका ताजदार मदीना ने फरमाया मुझ पर दरूदे पढ़ता जा दरूदे पढ़ता जा दरूदे पढ़ता जा अल्लाह ऐसा राजी होगा अल्लाह ऐसा राजी होगा कि फिर कभी नाराज नहीं होगा अरे कहो ना अरे हम लोग तो कभी राजी और कभी हमारी बीवी कभी राजी और कभी लेकिन दरूद पाक का वो पावर है कि पढ़ ले अल्लाह फरमाते अल्लाह फरमाते मेरे आखिरी नंबर पर दरूद पढ़ ले अल्लाह फरमाते मेरे आखिरी नंबर पर दरूद पढ़ ले मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा ऐसा राजी हो जाऊंगा कि फिर कभी नाराज नहीं होगा तू जमीन पर चले तो भी मैं राजी तू कबर में सोए तो भी मैं राजी तू कयामत में आए तो भी मैं राजी हिसाब किताब का मामला हो तो भी मैं राजी अरे बता दूंगा तो भाई पढ़ेंगे घरों तो के पास पढ़ेंगे इंसान आपने कहा घरों के पास पढ़ेंगे तो कौन राजी होगा ऐसा राजी ऐसा राजी होगा कि फिर कभी आता अरे बोलो फिर कभी नाराज जरूर बात शुरू करें मेरी जुबान पर मोहम्मद आपकी जुबान पर सल्लल्लाहो अलैहि की ये नियत करके जरूर पाक पढ़े कि अल्लाह तू राजी हो जा ऐसा राजी हो जा कि फिर कभी हमसे नाराज मत होना अल्लाह अल्लाह अल्लाह हमसे नाराज है इसीलिए आसमान का तेवर बदला हुआ जमीन का तेवर बदला हुआ कभी गर्मी आई तो ऐसी कड़ाके की गर्मी आई कि बर्दाश्त न होए ठंड आवे तो कड़ाके की ठंड आवे बर्दाश्त न होए बारिश गिरे तो तूफान बारिश गिरे ये सब बताता अल्लाह हमसे नाराज है अरे जरूर पाक पढ़ ले ऐसा राजी कर ले कि फिर कभी नाराजी नहीं होगा जिस पढ़ेगी शुरू पूरा मजबा कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन محمد العالمي محمد الفتحي محمد الإمامي محمد कितनी मतलब तो। मेरे दो काम हो गए मैंने दो काम तो पूरे कर लिया या अल्लाह का करम है अल्लाह का जिक्र भी हो गया और अलहमदुल्ला हमने जरूर बात भी पढ़ा अब मुझे तीसरा काम करना है आपके साथ में जरूरी बात करना है लेकिन मैं बात शुरू नहीं करूंगा जब तक आपकी परमिशन न हो आप बताओ कितनी देर मुझे बात करना अब जितनी देर पहली मरतबा मैं भी हंसता हूँ मेरे प्यार पहली मतलब जो भी आता है उसका दिल थोड़ा ठक ठक ठक ठक है तो आप लोग बोलो जितनी देर आप बोलो दस मिनट तो दस मिनट आधा घंटा तो आधा घंटा पौना घंटा तो पौना घंटा आप बस जो टाइम दोगे वो टाइम पर मैं बात खत्म करके चला जाऊंगा बोलो मैं सबसे पूछ रहा हूँ सबसे पूछ रहा हूँ नहीं हाँ। से बहुत ताजुब हुआ मेरे को कोई पौने बारह ही बोलता है कोई बारह बोलता है कोई दो घंटा बोलता मतलब वो भी बारह ही हुआ इसका मतलब है कि तुम्हारी बीवी ने कहा होगा कि बारह बजे के बाद आएगा तो दरवाजा बंद कर दोगे कोई बात नहीं फिक्र मत करो हंसो मत और फिक्र मत करो तुम मैं जब बोल धरा में आया तो बहुत खुशी हुई मैं अकेला समझता था कि मैं बीवी से दुखी हूँ यहाँ के मालूम वो और भी बहुत सारे और जब दुख सब में आ जाता है तो बहुत हल्का हल्का हो जाता है हम और आप बताने चलो आपकी बीवी ने जो चाय बताया बिल्कुल चौके चौके कि मैं जान बुझे मेरा मैदान तैयार कर रहा हूँ ये हंस रहे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पैरवा बोलूंगा तो फिर भागना नहीं है यहाँ पे दोस्ती पक्की है हमारी दोस्ती पक्की है मैं सही बताऊँ यहाँ जब मैं आ रहा था ना अभी नवसारी में अमित भाई करने में मुझे बुखार चढ़ गया अभी अभी यहाँ आया बुखार चढ़ गया मैंने अमित भाई को कहा कि बहुत मुश्किल है मैं पूछ रहा था बोल कितना दूर है अभी मैं घर अमीरा कितना दूर है अमित भाई ने कहा बस यहाँ से पाँच किलोमीटर मैंने ठीक था अमित भाई को मैंने कहा कि बहन कैंसिल कर दो तो अच्छा है बयान कैंसिल कर दो तो अच्छा फोन करो तो उनको कि भाई नहीं मौलाना की तबीयत बना दो अमित भाई ने कहा नहीं तो हो ही नहीं सकता वरना ये लोग मेरा जीना आराम कर देंगे मैं कैसा है मालूम बोल रहा कैसा है मालूम ये आपने देखा होगा ना ये बारिश होगी बारिश होगी ना बारिश जब होगी हमारे गुजरात में और हमारे गांव में जो बारिश होगी ना तो आपने देखा होगा बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूमते घूमते भी नहीं घूमते अरे बोलो ना हाँ आपने देखा लाइट जहाँ भी आपने जला दिए कि पूरा आदमी परेशान हो जाता है कि क्या है मामला है कि सही ना और आज तक हमारे गाँव में तो बहुत ज्यादा होता है गुजरात के गाँव में एक आपने देखा होगा काला कीड़ा है काला कीड़ा इतना बड़ा होता है इतना बड़ा काला कीड़ा हाँ, हाँ। तो बिल्कुल दूर रखो तो ऐसा लगता है जैसा काला जामुन दूर से देखो तो कैसा लगता है जैसा काला नहीं एक मतलब क्या हुआ हमारे कोई कोई जामुन बेचता था और हमारा इंडिया में सब चलता है कोई जामुन बेच काले जामुन बेचता था उसमें वो बारिश का टाइम था तो कीड़ा उड़ता उड़ता उड़ता उड़ता टोकरी में किसकी टोकरी में तो काला जामुन काला जामुन तो पहले से था वो कीड़े की शक्ल भी कैसी है काला तो अब अब कोई आया कोई कोई आया मोल धरा का कोई होगा वो आया आकर का भाई दस रुपए के जामुन देना कितना दस रुपए के हाँ, दस रुपए निकाला जामुन देना उसने लेके जामुन दिया तो साथ में वो कीड़ा भी पकड़ा दिया अब वो मोल धरा वाला था मोल धरा वाला उसने उसने जो है ना उसने खाया जामुन खाया पहला जामुन खाया बहुत तो अच्छा लगा दूसरा जामुन खाया वो भी बहुत अच्छा लगा तीसरा खाया वो भी बहुत टेस्टी अब चौथे नंबर पर केले को उठाया फट करके मुंह में डाल अब मुंह में डाला और दांतों के नीचे दबाया अब जब दांतों के नीचे दबाया तो कीड़ा चीची चूचू चीची चूचू करने लगा उसने क्या कहा तू चीकर के चू कर दस रुपया दिया खा छोड़ोगे मैं भी यहाँ नौसारी पहुंचा अम्मी माँ के घर पे पहुंचा अम्मी माँ के घर पे जाके मैं बहुत बीमार हो गया वो बेचारा तेल की मालिश भी एक आदमी कर रहा है एक आदमी पाँव भी दबा रहा मैं कह रहा हूँ मैं बीमार हो गया मोल जरा तक जाना बहुत मुश्किल है अम्मी माँ ने कहा चीकर के चू चूकर जाना पड़ेगा तो मेरा हाल ये ऐसा कि मैं अमीन भाई के दांतों के नीचे दवा की चू चू करता रहा लेकिन किसी ने मेरे ऊपर दबाव नहीं किया और आप लोगों ने तो बिल्कुल नहीं किया उसमें ये मौलाना ना ये कि ये इन्होंने बिल्कुल मेरे ऊपर गाँव लेकर यहाँ मैंने कहा असल अच्छा, में मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं जल्दी कुर्सी पर बैठू मैंने कहा कोई और पढ़ने वाला हो तो पढ़े तो कहता नहीं मौलाना तेरे कुछ तो पढ़ना है तेरे को बयान भी करना है किला से सभा भी करना है ये तो ऐसा समझता जैसे कोई लीमो को बुलाया जितना निचोड़ रहा निचोड़ चलो शुरू करो बात शुरू करो मैं वादा नहीं करता एक घंटा दो घंटा कोई वादा नहीं करता लेकिन बात करूंगा और देखूंगा कि मेरा माल कितना बेहतर है समझे मेरा माल कितना हाँ, मेरे दोस्तों अल्लाह रसूल की दौलत से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई दौलत है मेरे दोस्तों में एक दो बातें आपके सामने एक वाक्य से मैं बात को शुरू कर रहा हूँ वाक्य बहुत प्यारा है अच्छे अच्छे वाक्य तो सबको अच्छे लगते हैं अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं आज हम एक वाक्य लेकिन उस वाक्य से हम फिर बातों को निकालेंगे अच्छा फिर जवान जवान भाई बैठे मैं कड़वा बोलूंगा तो नाराज तो नहीं होंगे ना नहीं मेरे कहो नाराज तो नहीं होंगे ना इसलिए जाने का रास्ता भी नहीं है पीछे से सब बिल्कुल गिरे हुए हैं नाराज बोलते ही बोलो नाराज तो नहीं होंगे ना ना अभी भी जवान की आवाज नहीं आ रही नाराज नहीं होंगे ना और उठ के गुस्से में जाओगे भी नहीं ना वाक्य सुनाओ ना बहुत प्यारा वाक्य बहुत प्यारा वाक्य ऐसा बहुत प्यारा वाक्य इतना प्यारा वाक्य कि आपका दिल खुश हो जाएगा मेरे प्यारों मक्का में मक्का में सुना मक्का में एक बहुत पुराना वाक्य था बहुत पुराना मक्का में बारिश नहीं हो रही साथ में बोलो मक्का में बारिश मक्का वाले बहुत परेशान मक्का वाले बहुत परेशान इसलिए कि एक लंबा जमाना गुजर गया मक्का में पानी नहीं और ऐसी चिलचिलाती गर्मी ऐसी खतरनाक गर्मी कि मक्का वाले परेशान यहाँ तक हदी से बाद में लिखा ऐसा मामला आया कि जानवर बनने लगे बच्चे बिल मिलाने लगे घर में औरतें तड़पने लगी बाहर मर्द जाए तो तड़पे इसलिए कहीं पानी में पूरा मक्का सूखा हुआ और ऐसी गर्मी सूरज की गर्मी मक्के की जमीन की गर्मी आफ्ताब की गर्मी अजीबो गरीब हाल था मक्के में अब करे तो क्या करें करे तो इसलिए ये उस वक्त की बात है यानी इतनी पुरानी बात है ये उस वक्त की बात है जब हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी की उम्र तो नौ साल थी कितने साल यानी मतलब है कि हमारे नबी को नबूत मिली नहीं कुरान उतरा नहीं कुरान उतरा नहीं जिब्राइल से मुलाकात नौ साल और आप अंदाज लगाओ नौ साल की उम्र में हमारे नदी का चेहरा कैसा मासूम मासूम और कैसा चमकता चमकता कैसा दमकता दमकता चेहरा होगा ये उस वक्त की बात है मक्के में पानी थी अरे बोलो मक्के में पानी और हमारे नदी की उम्र याद रखना किसी उम्र उस वक्त हमारे आपका साल की नौ साल हाँ, बिल्कुल पूरा पक्का सूखा हुआ और सारे लोग परेशान उस वक्त अब करें तो क्या करें मक्का के जो बड़े बड़े चौधरी थे ना मक्का के बड़े बड़े चौधरी बड़े बड़े रईस जायदाद वाले प्रॉपर्टी वाले वो कुल मिला के बत्तीस उस वक्त मक्का में बड़े बड़े सरदार कितने थे उस सब के सब जमा हुए आज मीटिंग करो मीटिंग करो कॉन्फ्रेंस मीटिंग करो काफी बात की मीटिंग बत्तीस के बत्तीस जमा हो गए और आपस में मीटिंग होने से क्या करे क्या आसमान से पानी आ गए इसलिए जमाना गुजर गया आसमान से पानी नहीं आता और यहाँ न कोई नहर है न कोई तालाब है न कोई समंदर है पानी आसमान से नहीं आता हमारे जानवर रोज मर रहे हमारे बच्चे छोटे छोटे दिन बिताते रात को पानी के वास्ते हमारे घर के औरतें पानी पानी करती है हम बाहर निकल कर पानी पानी करते लेकिन यहाँ तो पानी का कचरा भी नहीं आता और बत्तीस से बत्तीस बत्तीस बड़े बड़े मक्का के चौधरी थे मक्का के रईस थे मक्का के बड़े प्रॉपर्टी जायदाद वाले थे वो सब के सब जमा हुए और रात चलो जल्दी जल्दी मशवरा करो कि पानी कैसे आवे लेकिन मेरे दोस्तों कितने भी आश्चर्य करो पानी कौन देने वाला अरे बोला पानी कौन देने वाला अल्लाह अल्लाह अल्लाह ताला खुद फरमाते अल्लाह खुद फरमाते अगर मैं पानी उतारू तो कोई रोक नहीं सकता और अल्लाह फरमाते अगर मैं रोकू बोलो बोलो बोलो आगे बोलो अगर मैं रोकू तो कोई ये सही है अभी इसका हम लोग यहाँ बैठे मुझ जगह में बारिश हो जाए मुझ जगह में बारिश हो जाए मैं कहूँ अल्लाह अल्लाह मेरा बयान है रोक रुकेगा और अभी नहीं हो रहा मैं तो अल्लाह बढ़ता है बढ़तेगा अल्लाह कहते ये मेरा खजाना है मैं उतारू तो कोई रोक नहीं सकता मैं रोकू तो कोई उतार नहीं सकता बोलो सही बोलो है ना कुरान में लिखा के नहीं लिखा पूरा मजमा बोले ना कुरान में लिखा के नहीं लिखा अल्लाह क्या फरमाते अल्लाह फरमाते मेरे बंदो अल्लाह आश्रय दो अगर मैं आत्मा से पानी बढ़ता हूँ मेरे पानी को कोई रोकने वाला पूरा मुजमा बोले मेरे पानी को कोई रोकने वाला क्या मक्का में इसके सिवा कोई चारा ही नहीं मीटिंग जमा हो गई कितने आदमियों की मीटिंग सब बड़े बड़े सरदार चौधरी रईस तो करें तो क्या करें आसमान से पानी इसलिए किसी के अंदर ताकत ही नहीं था आसमान से पानी उतारे चलो मीटिंग में बात तय हो गई रातों रात मीटिंग हुई और रात में मीटिंग में बात तय हो गई कि सुबह उजाला होने से पहले हम बत्तीस से बत्तीस काबे के पास जाएंगे और काबे के पास कोई नहीं आएगा सिर्फ काबे के पास काबा तो खान उस वक्त आबाद तो था सुबह तुम बत्तीस के बत्तीस से मिलकर मशवरा कर लिया कि ऐलान कर दो पूरे मक्का में ऐलान कर दो सुबह उजाला होने से पहले हम बत्तीस के बत्तीस मक्का के सरदार मक्का के रही मक्का के चौधरी हम काबे के पास जाएंगे काबे की दीवार को पकड़ेंगे और रोएंगे रोएंगे उस वक्त रोएंगे जब तक ऊपर वाला पानी नहीं बरसाएगा और हम काबे को छोड़ेंगे नहीं या तो मर जाएंगे या तो आसमान से पानी गिरेगा कहा हम गर्मी नहीं जाएंगे गर्मी खाना भी पिएंगे भी बस काबे की दीवार को पकड़ कर कहेंगे काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे पानी दे दे पानी पानी आया तो गड़ जाएंगे वरना अपनी छान दे देंगे लेकिन पानी को लाकर रहेंगे ये कितने लोगों ने मिलकर मशवरा कर लिया बत्ती सौ सौदा जाने का मशवरा कर रातों रात मशवरा हुआ कि सुबह उजाला होने से पहले हम सब के सब बत्ती से बत्ती काबे की दीवार को पकड़ेगा खूब खूब खूब रोएंगे खूब रोएंगे खूब मांगेंगे और वहीं पर रहेंगे न खाएंगे न पिएंगे भले मर जाएंगे लेकिन वापस चलो सुबह में जाने लगे मैं मशवरा हो गया रातों रात मशवरा मीटिंग खत्म चलो चलो सुबह उजाला होने से पहले अरे सब सरदार लोग निकले और सारा सारा मक्का जो है ना वो सब दूर से देख रहा सारे मक्के वाले दूर से देख रहे कि आज तो बड़े बड़े सरदार आ रहे आज तो मक्का के जो बड़े बड़े सरदार है ना वो सब आज काबे के पास आ रहे इसे औरतें बाढ़ बच्चे सब दूर से देख रहे हैं और मक्के का सरदार एक वहां से निकल रहा है वहां से निकल रहा है वहां से निकल रहा है कितने को जमा हो रहा है इसमें हमारे नबी के चचा वो तारीफ भी है बोलो हमारे नबी की चचा कौन साथ में बोलो कौन अबू वो भी वो भी इसलिए वो भी बत्तीस में वो भी एक है वो भी मक्का के सरदार है अरे मक्का में सरदार कोई वहां से आ रहा कोई उधर से आ रहा कोई घर से आ रहा कोई उधर से आ रहा सब चारों तरफ से मक्का के सरदार आ रहे और सब लोग देख रहे हैं कि आज तो काफे के पास मक्के का करीम आ रहा है मक्के के सरदार आ रहे मक्के के चौधरी आ रहे मक्का के रईस आ रहे अरे काफा के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग आ रहे अब वो बत्तीस के बत्तीस आए उसने चर्चा अबू तालिब भी निकले अभी उजाला नहीं हुआ था चचा जब वो तारीफ अपने घर से निकले तो पीछे से हमारे नबी की आवाज आई कहो सुबह हमारे नबी की उम्र कितनी थी हमारे नबी ने कितनी मासूम जबान में कहा यार अम्मी इधर माही इधर के चाचा अकेले क्यों जा रहे हो मुझको भी लेके जाओ चाचा अकेले क्यों जा रहे हो मुझको भी तो चाचा ने पीछे मोटर देखा कि सुबह सुबह में मेरा भतीजा हाँ, उठा हुआ चलो चलो चाचा ने कहा तुम भी चलो भाई पानी मांग रहा है ना चलो तुम भी चलो जैसे कभी कभी हम भी मस्जिद में आते तो छोटे बच्चे को भी उंगली पकड़ के साथ में चले चले चचा आगे आगे और भतीजे भतीजे कौन मोहम्मद रसोल्ला और उमर कितनी उमर कितनी लेकिन जब काबे के पास पहुंचे तो चचा ने देखा यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग जमा है मक्के का ये करता आगे दूसरा ये तीसरा सब काफी के पास जमा अब चचा तो मैं तो सबने भतीजा दी तो जो दूसरे थे ना सबका चेहरा उतर गया कि यहाँ बड़े बड़े लोग आए इसमें बच्चे का क्या काम है भाई बड़े बड़े लोग आए बच्चे का क्या काम तो चचा समझ ले कौन चचा चचा तारीख ने अपने भतीजे को क्या कहा सुनना चचा ने अपने भतीजे को क्या कहा मैंने की ये मेरे भतीजे यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं इजली द्वारा आना चाहो तुम पीछे जाके बैठ जाओ यहाँ मत खड़े रहो यहाँ खड़े रहते हो तो सब लोग घूर घूर के देखते हैं कि हम बड़े बड़े लोगों के बीच में बच्चे का क्या काम जहाँ तुम पीछे चले जाओ जैसे मैं कहूँ अगर कोई हमारे मोल घरा का अपने बच्चे को मस्जिद में लेकर आता गया मैं मस्जिद में लेकर आता गया लेकिन क्या करेगा खुद पहली सब में खड़ा होगा और बच्चे को अरे बच्चे को क्या कहना तू तो वहां पे नमाज हो जाएगी तो मैं तेरे को लेके जाऊंगा ऐसा ही होता ना तो सरकार ने भी यही कहा कि भाई यहाँ सब बड़े बड़े बत्तीस मक्का के सरकार जमा तुम तो छोटे हो तुम्हारी उम्र ही नौ साल है क्या ना अखिल मेरे भतीजे जाओ तुम जाओ कहा बैठ जाओ हाँ, उम्र कितनी थी समाज तो कोई बात नहीं चचा मैं जमा ऐसा है हमारे लिए ओ पीछे जाके बैठ गए पीछे जाके और ये बत्तीस से बत्तीस जमात आपस में एक दूसरे को इशारा किया चलो शुरू करो मांगना शुरू करो मांगना शुरू करो अब कितने थे ये लोग क्या मांगा वो सुनना क्या मांग रहे था बत्तीस के बत्तीस सबके सब जमा हो गए काबे की दीवार को पकड़ लिया बत्तीस के बत्तीस ने मक्का के सरदारों ने रईसों ने काबे की दीवार को पकड़ा और मांगना शुरू किया यार बिना भाई यार बिना करते जा रहे काबा काबा के पैदा करने वाले पानी दो तीन घंटे हमारे हिसाब से दो तीन घंटे गुजर गए पानी नहीं आया पानी बल्कि उछाला हो गया और सूरज भी निकला अब तो जमीन भी गर्म और आसमान भी काबे की दीवार को पकड़ के काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे और काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे तीन चार घंटे में होंगी कि नहीं होंगी जमीन भी गरम आसमान भी गरम काबे की दीवार भी गरम और ये मांग रहे एक काबा वाले एक काबा के पैदा करने वाले एक काबा के पैदा करने पानी दे दे तीन चार घंटे गुजर गए पानी अब सीने में सब सुनना क्या हुआ मालूम चचा भी मांग रहे थे कौन चचा किसी ने चचा का कपड़ा पकड़ा पीछे से किसी ने चचा का कपड़ा पकड़ा कि चचा ने पीछे मोटर देखे कि कौन देखे तो भतीजा कौन रिपोर्ट कौन बहुत बदीजा मोहम्मद और उम्र कितनी सुना सुना हमारे नबी की क्या मासूम अंदाज हमारे नबी चचा ने कहा तुम तुम क्या हमारे नबी ने क्या जुमला क्या कर रहे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग चार घंटे से इतने लंबे टाइम से क्या कर रहे हो चचा ने कहा तुम्हें अब तो पसीने में चचा का टेम्पल भी गर्म पूरे पूरे पसीने में कहा तुमको नजर नहीं आता हम पानी मांग रहे पानी चार घंटे से कह रहे पानी मगर पानी नहीं आता हमारे नबी की उम्र कितनी थी क्या फरमाया क्या फरमाया हमारे नबी ने क्या फरमाया और चाचा तुम लोग हटो मुझ पर आने दो अरे बोलो क्या फरमाया तुम लोग साइड पे हटो मुझ पर आने दो एक बात कहूंगा कसम उसकी पानी बरसा दे कितनी बात कहूंगा एक बात हमारे नबी ने क्या फरमाया हमारे नबी ने क्या फरमाया अपोलो कौला देगा एक बार तो चक्कर तो बहुत गुस्सा हुए कहा हम लोग इतने मक्का के सरदार चार घंटे से मांगे पानी नहीं आए तो एक बार बोलेगा तो पानी आ जाएगा बहुत गुस्से हुए हम मक्का के सरदार है चौधरी है रही थे मक्का की जायदाद जमीन खेत सब हमारा है हम चार घंटे से मांगते पानी पानी पानी नहीं आया पर मेरे भतीजे तुम्हारी उम्र नौ साल की तुम कहते हो एक बार कहूंगा तो पानी आ जाएगा ऐसा थोड़ी होता ये सरदार मांगे तो नहीं मिले और तुम मांगो तो जैसा बहुत मुझसे मुझसे भी क्या कहा जाओ पीछे बैठो या कट चले जाओ या तो पीछे बैठो या तो हमारे नबी चले बोलो हमारे नबी कहाँ चले गए पीछे जाकर घर नहीं गए पीछे जाकर बैठ गए और हमारे नबी नौ साल की उम्र आंखों में आंसू आ गए वहीं पर बैठे और इन लोगों ने फिर मांगना शुरू कर दिया बोलो इन लोगों ने फिर मांगना शुरू कर वही मांगना शुरू कर दिया एक आवा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे एक आवा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे एक आवा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे और दो तीन घंटे बोलते थे कि और दो तीन घंटे मैं कहता हूँ हमारा इंडिया होता तो हम कहते सबके बारह बजते भाई और दो तीन घंटे बाद अब तो ऐसा हाल कि चलो सुबह तीन लोगों ने खाया नहीं पिया नहीं है और गर्मी में जमीन भी गर्म आसमान गर्म ताबे की दीवार गर्म कोई इधर गिरता है कोई है बेहोश हो रहा कोई इधर गिरता कोई चक्कर खा के इधर जाता कोई उधर गिरता कोई ताबे की दीवार को पकड़ के रो रहा है कोई इधर खड़ा हुआ है अजीब वो गरीब आलम है लेकिन हमारे चचा कौन पीछे से फिर किसी ने कपड़ा पकड़ा चचा जी मुड़े कौन देखा तो वही कौन हमारे आका मोहम्मद और उम्र कितनी उम्र कितनी तो चचा गुस्से गुस्से होने के मुड़ में गुस्से होने तो ऐसे भी भाई जब वो चार घंटे में इतना गुस्सा तो आठ घंटे में इतना गुस्सा होगा अरे उम्र टेम्पर गर्म होगा कि नहीं चचा गुस्से होने के मुड़ में मना दिया हमारे नबी ने कहा चचा क्या तक जला लिया उसको गुस्से में तो मैं तो सिर्फ आपकी पेशानी पर पसीना बहुत है ना उसको साफ करने के लिए हमारे नबी से बढ़कर अकल वाला तो कोई नहीं होगा रकम वाला और फिर हमारे नबी ने अपनी चादर ली और चचा की पेशानी से पसीने को क्या करने लगे साफ कर रहे बताओ चचा को प्यार आएगा कि नहीं आएगा तो कोई भी भतीजा इस तरीके से चचा की पेशानी को साफ करे चचा की पेशानी चेहरे पर तो चचा भी बहुत खुश हो गए भतीजे को गले लगाया जैसे भतीजे को गले लगाया हमारे नबी ने मुद्दे की बात बोल दी चंपा का नदी पास में देखा कि चट्टा मोड़ में आ गए चट्टा चट्टा मुझको आने दो मुझको आने दो एक बात बोलूंगा अल्लाह आसमान से अभी चट्टा कुछ आगे बोले लेकिन बाजू में जो था बाजू में जो खड़ा था बेचारा बहुत गुना किया खा रहा था उसने सुन लिया उसने सुन लिया कि ये कुछ बोल रहे हैं और सजा मान नहीं रहे वो खड़ा हुआ कहा कि हो तालीम ये तुम्हारा भतीजा क्या बोल रहा है भतीजा क्या बोल रहा तो हमारे नबी ने कहा मैं खुद ही बोल रहा हूँ मैं यही समझा रहा हूँ कि मुझको आने दो एक बार मैं आऊंगा एक बार कहूंगा अल्लाह आसमान से पानी बोलना अल्लाह आसमान से पानी तो, तो बेचारा बोला गया खा रहा था उसने तो उसने तो ऐलान ही कर दिया कहा पानी आ गया हो समझ में बावला हो गया पागल हो गया कहा पानी आया सबके सब पानी मांग रहे पानी का तो कचरा भी नहीं आया पानी कहाँ आया कहा पानी कहा सबने का पानी का कहा पानी आया नहीं लेकिन ये जो है ना अबू तालिब के भतीजे जिनको हम मोहम्मद कहते हैं ये मोहम्मद कह रहे मैं एक बात कहूंगा आसमान से पानी आएगा इनको अंदर आने दो अल्लाह आसमान से पानी वो तो बेचारे परेशान थे कि बहुत परेशान सब सबने मिलकर कहा आने दो आने दो आने दो आने दो मेरे दोस्तों क्या शान होगी हमारे आपका चाचा तो बत्तीस बत्तीस सरकार थोड़े साइड पर रह गए थोड़े थोड़े साइड पर रह गए कौन आ रहे हमारे आपका मोहम्मद रसगुल्ला पूरे मजमे को पूरे मजमे से निकलते हुए ये चांद का टुकड़ा जैसे समझो रात के अंधेरे में निकला होगा अल्लाह के रसूल पास आकर महाकाबे के पास खड़े हो गए अब सबने कहना शुरू किया हाँ, हाँ मोहम्मद मांगो मांगो मांगो तुमको जो मांगना है मांगो जो मांगना है मांगो हाँ, अल्लाह पानी है तुम मांगो तुम मोहम्मद तुम्हें अल्लाह ने बता दिया अल्लाह ने बता दिया मक्का के सरदारों तुम दाएं बाएं होंगे बीच में तो दुनिया का सरदार खड़ा होगा अरे वो भी नहीं बोलो ना सल्लाह हो अब सुना मामला बहुत अजीब होता जा रहा सब खड़े क्या रहे मांगो मांगो हमारे नबी ने सबकी तरफ देखा कितने थे आपने बोला कितने थे क्या फरमाया हमारे हमारे नबी ने क्या फरमाया कुछ नहीं मांगूंगा कुछ नहीं तो सब हैं कि कुछ नहीं मांगोगे मतलब हमने तो आपको अंदर बुलाया हम बड़े बड़े सरदार हैं लेकिन फिर भी हमने आपको हमारे आका ने सबकी तरफ देखा हिम्मत को तो देखो हिम्मत को तो देखो हमारे आका पासंदर को अल्लाह ताला ने जो हौसला दिया था बत्तीस के बत्तीस को कहा तुम तुम तुम तुम मांग रहे थे ना पानी अरे ना कौन तुम मैं कहा था मैं कहा था बताओ मैं कहा था अब सबके सब बत्तीस को तो मालूम है जब सबने कहा तुम पीछे बैठे थे हमारे नबी ने कहा बात बिल्कुल पक्की हो गई तुम मांग रहे थे मैं अब मैं मांगूंगा तुम सब पीछे चले जाओ अब तो मैं मांगा मेरी मेरी बारी है ना तुम्हारी बारी थी तो मैं पीछे बैठा था अब मेरी बारी आई है पीछे चले जाओ अब जो पीछे जाने की बात कही तो वो तो मक्का के सरदार बच्चा आगे और हम ऐसे पंद्रह सौ है तो उसमें से लिखा है कि बीस तो चले कितने चले गए बीस को तो चुपचाप चले गए हाँ चलो चलो चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे जाके खड़े हो गए बारह नहीं कितने नहीं हाँ, तो हमारे नबी ने कहा कि ये लोग क्यों नहीं जा रहे पीछे काम तो नहीं जाएंगे एक बच्चा आगे और पीछे अरे हमारी इज्जत है हमारी हमारी नाकत जाएगी बच्चा आगे रहेगा हम पीछे जाएंगे ये घर की औरतें और मक्का के बच्चे क्या बोलेंगे ये बच्चा हमारे नबी ने क्या फरमाया देखो जाते हो तो चले जाओ वरना पैदा करने वाले की कसम एक बार मैं चला जाऊंगा कयामत आएगी लेकिन मक्के में पानी नहीं आएगा तो वो बारह भी सोचने लगे कि जाना तो पड़ेगा वो कितने चले गए थे और उन्होंने कहा आजा मैं विषय पर आ था मेहनत से बीवी बेवा हो जाएगी बच्चे इतनी हो जाएंगे आ आजा अब वो बेचारे बारह भी वो बिगाड़े बिगाड़े बिगाड़े इधर उधर करके जनता के सच्चाई में खड़े हो गए अल्लाह दुनिया का बड़ा मान होगा सब पीछे खड़े पहले तो सब साइड पर खड़े तो सब सबके सब पीछे और हमारे नबी और वो पीछे बताओ गुस्से में होंगे कि नरम होंगे बोलो बोलो लाल पीले होते होंगे कि नहीं होते होंगे अब वो पीछे खड़े तो होंगे और क्या कह रहे मालूम जो कह कहा कुछ नहीं कहूंगा क्या फरमाया कुछ नहीं अब जब कहा कुछ नहीं कहूंगा तो ऐसे तबे तभी बोल थे मैं धर्म धर्म जब हमारे नबी ने कहा कुछ नहीं कहूंगा तो इतने गुस्से हुए सीधे चचा के पास गए चचा के पास देखा तेरे भतीजे को समझाते तेरे भतीजे को समझाते हम तो मरेंगे मरेंगे लेकिन मरना कहीं ऐसा न हो कि हम इनको मारना है इसलिए हमारी तो इज्जत दी गई और अभी भी कह रहे कुछ नहीं कहूंगा तो हमारे नबी पीछे बोले का यार हुआ था मक्का हमारे जैसे अपनी जबान मुबारक खोलिए मक्का पे कर दो इतना उछलने की क्या जरूरत है इस वक्त थोड़ा दूसरा और फिर हमारे नबी ने पूछा तुम लोग मतलब क्या करते थे भाई तुम लोग मतलब और गुस्से में क्या कर रहे पानी मांग रहे थे पानी क्या तुमको नजर नहीं आ रहा हम पानी मांगते थे तो हमारे नबी ने कहा तुम इतने गुस्से मत हो नौ साल की उम्र थी बड़ी हिम्मत से कहा गुस्से मत हो तुम पानी मांग रहे थे अगर मैं भी पानी मांगू तो तुम में और मेरे में फर्क क्या होगा अरे तुम पानी मांग रहे शायद तो आगे चलकर नबी बने तो मेरे को और तुम्हारे में फर्क तो वो पीछे तो ऐसे भी काले काले तो हो गए थे गुस्से में थे कहने लगे तुम तुमको तुम बस पानी लाओ पानी हमारे नबी ने फरमाया सुना उम्र कितनी थी तो आपने कह दो तो कितनी उम्र थी अब देखो वक्त आया हमारे आका ने नौ साल की उम्र में फरमाया तुमने पानी मांगा अगर मैं भी मांगू तुम में मुझ में फर्क क्या होगा तुम तो एक काम करो मेरा चेहरा देखो क्या फरमाया मेरा तो वो सब बेचारे इधर खड़े थे तो कोई इधर खड़ा कर दिया पीछे खड़े इधर खड़े थे जो तो में मेरा चेहरा देखो अब वो बेचारे वैसे भी तो हालत खराब पीछा के खड़े हो गए कहा चलो तुम्हारा चेहरा देखते बोलो अब क्या करें चेहरा हम आगे थे हमको पीछे कर दिया पीछे थे और पीछे कर दिया चेहरा देखो चेहरा देखते हम क्या करें वो बच्ची से बच्ची जितने खड़ा मेरा चेहरा देखो मेरे पैदा करने वाले की कसम मैं कुछ नहीं कहूंगा चेहरा उठाता जाऊंगा खुदा पानी बरसाता जाएगा मैं कुछ कहूंगा नहीं मैं चेहरा अरे बोलो ना मैं चेहरा सुनो नदी के बाद में लिखा हमारे आका दादे दादे मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की थी पूरा मजमा हो रही थी ¡Gracias! आसमान की तरफ कर दिया वो पानी बढ़ता पानी बढ़ता पानी बढ़ता लेकिन अल्लाह की आवाज है बोलो सुबह अल्लाह बोलो अल्लाह की चेहरा भी उठाया उंगली भी बरसा देखा मैं पानी बरसा देखा अरे बात समझ में आती नहीं है बोलो बोलो बात समझ में आई पानी आया खूब पानी आया मौलाना जलालुद्दीन रूबी साहब ने बोलो कौन मौलाना मौलाना जलालुद्दीन रूबी ने ये वाक्य बयान किया ये वाक्य बयान करने के बाद उन्होंने जो अशार लिखे उन्होंने जो अशाक ये अशाक सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ ये अशाक सुनो मौलाना जलालुद्दीन रूमी भी अशाक लिखे खाब में हमारे नबी को देखा नबी ने फरमाया रूमी ऐसे अच्छे अशाक लिखा है कि तेरी तो मफफिरत हो गई कोई प्यार से पढ़ेगा सुनेगा उसकी भी मफफिरत कर गई है मैं बोलू अशाक अच्छा पढ़ो बोलो अशाक अच्छा पढ़ो मेरे दोस्तों ये बात क्या तो समझ में आ गया ना पानी बदल गया कि नहीं बदल गया और हमारे नबी घुंगली से क्यों बता देता मैं आसमान से पानी ये वाक्य बयान करने के बाद मौला घुंगली कहते हैं हमारे नबी की शान साथ में कहो हमारे नबी की शान से बढ़कर कोई शान अरे पूरा मजमा बोले ना कोई शान मौला घुंगली ने वो चार चार छोटे छोटे मित्रे जिस पर मकबियत के वादे मिले मौला घुंगली फरमा कर लोगे इंशाल्लाह अरे बोलो नहीं याद कर लोगे ना तो इसको कभी रात के चढ़ना से मैं मोहब्बत के साथ गुनगुनाओ मैं कसम खाकर कहता हूँ नबी की याद ताजा हो जाती है इसलिए मोहम्मद रूबी ने फरमाया मेरे नबी की शान कैसी भाई शान कैसी कसम बाबू को खसफल कमर भी जमान लीजिए इनके चेहरे की खूबसूरती तो देखो ये आसमान की तरफ देखते हैं तो चौधरी रात का चांद भी शर्मा जाता है आसमान की तरफ देखते हैं तो चौधरी रात का चांद भी बोलता मैं मेरे पास वो खूबसूरती नहीं जो मोहम्मद के पास है तो हजारों की ही मेरे की शान देखो मक्का के जंगल में जाए मक्का के बलाबाद में जाए एक तरफ और पत्थर भी आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए और कहा मेरे नबी की शान देखो उम्र ने नौ साल चेहरा उठा दिया खुदा ने रहमत की घटाए बरसा दी इसे जरूर पढ़ना है बोली पर पढ़ो कहो सल्लल्लाहु तो वाक्य आपने सुना वाक्य मैंने बोलो ना बोल रहा वाला वाक्य वाक्य सुना कुछ समझ में आया अरे बोलो ना तो कुछ समझ में आया अच्छा लगा वाक्य इसे तो समझ में नहीं आया तो आदमी बहुत गड़बड़ करता है अरे मालूम है समझ में नहीं आया तो बहुत गड़बड़ करता है एक मरतबा किसी ने पढ़ा रहा होगा दिल्ली में कुतुब मीनार है दिल्ली में कुतुब मीनार है सामने वाले ने क्या लिखा दिल्ली में चार कुत्ते बीमार हैं होता तो है आप लोग ऐसा तो नहीं करोगे समझोगे मेरी बात ये वाक्य समझ में आया ये वाक्य आपको क्या बताता है ये वाक्य हमको क्या बता है सबसे पहली बात ये वाक्य हमको ये बताता है कि नबी ने अपना चेहरा उठाया बोलो बोलो साथ बोलो नबी ने अपना चेहरा अनवर सल्लल्लाहु उठाया अल्लाह ने आसमान से जो अल्लाह कहता जब जमीन से रहमत आई तो आसमान से भी रहमत आएगी रहमत का बदला रहमत हुआ करता है बोलो नबी ने चेहरे अनवर उठाया अल्लाह ने आसमान से रहमत इसका मतलब ये हुआ कि नबी का चेहरा रहमत वाला है बोलो नबी का चेहरा पूरा बदला है नबी का चेहरा का चेहरा और बुलंद आवाज नबी का चेहरा मेरे को कान में बहुत तकलीफ देती है जोर से बोलो नबी का चेहरा अच्छा एक बात बताओ ये नबी का चेहरा ऐसा रहमत वाला भी ऊपर देखे अल्लाह कहे मेरे प्यारे महबूब का चेहरा अल्लाह की रहमत बढ़ता दे मेरे दोस्तों आज नबी अपने रोजे मुबारका में आराम फरमा रहे लेकिन चेहरा तो देख रहे अरे बोलो चेहरा तो देख हमारे नबी आज भी फरमाते मैं रोजे मुबारक में आराम करता लेकिन मेरे चेहरा वाला चेहरा उठाने आज भी खुदा रहमत बरसा देगा भाई सही नहीं मेरे चेहरे वाला चेहरा उठा दे अल्लाह आज भी रहमत सच बोलो नबी के चेहरे से बढ़कर कोई रहमत मेरे पूरा मजमा बोले नबी के चेहरे से बढ़कर कोई रहमत बल्कि मैं आपको सवाल पूछ जरा आप लोग जरा मैं पहली बार आया हूँ तो आप भी थोड़ा हिचकिचाते हो मेरी तो हिम्मत खुल गई आपकी अभी तक तो पूरी अभी तो चल जाती हिम्मत नहीं बोलेगा आप नहीं करेंगे ईमान से कहना वो अल्लाह को हाजिर नाजिर रखे ईमान ईमान से कहना ईमान से कहना हमारे नबी के पाव से बढ़कर कोई पाँव होगा नहीं बोलो हमारे नबी के कदम से बढ़कर कोई कदम होगा हमारे नबी की जो तलवे थे ना तलवे इससे बढ़कर कोई तलवा होगा यानी साथ में बोलो कोई तलवा होगा मेरा भी तलवा मेरा भी तलवा है आपका भी तलवा है हाँ? लेकिन हमारे नबी का भी तलवा था फर्क है कि नहीं अरे बोलो फर्क है कि नहीं क्या फर्क है आपको बताऊं क्या फर्क है बताऊं ये मेरा तलवार है बोलो ये मेरा तलवार है जो जमीन पर रगड़ता है आपका तलवार है जो जमीन पर रगड़ता है नबी का तलवा वो तलवा था जिसको जिब्राइल भी छुपा सकते थे जिसको जिब्राइल भी अरे बोलो साहब ने बोलो जिब्राइल नबी का ये जो तलवा है ना तलवा हजरत जिब्राइल चूमते थे बोलो हजरत जिब्राइल पर एक मरतबा एक मरतबा हमारे नबी ने पूछ लिया जिब्राइल मेरे तलवे पर चूमते हो एक मरतबा हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल तुमने तुमने कंबल का कदम लिया तुमने मेरे तलवे को चूमा तुम्हें कैसा लगा अरे हमारे नबी ने पूछा तुम्हें कैसा हजरत इब्राहिम ने क्या जवाब दिया सुना सब लोग कहते सुबह हजरत ने जवाब दिया हमारे नबी ने पूछा कंबल का कदम लिया है इब्राहिम तुमने मेरे ये तलवे को चुना तो तुम्हें कैसा लगा हजरत इब्राहिम ने क्या फरमाया हजरत ने फरमाया मेरे प्यारे प्यारे नबी मैंने आपके को बोलो अरे पूरा मजमा बोले ना हजरत ने फरमाया تو مجھے کیسا لگا ارے میں نے آپ तलवे में जन्नत की उससे भी ज्यादा जो खुशबू जन्नत में न मिली वो आपके तो जो नबी का तलवा इतना प्यारा होगा वो नबी का पाव कितना प्यारा होगा और जो नबी का पाव इतना प्यारा होगा तो नबी के हाथ कितने प्यारे होंगे अरे बोलो हाथ प्यारे हो अरे बोलो साथ में बोलो हाथ प्यारे होंगे कि नहीं होंगे अरे मैं तो कहता हूँ हाथ नहीं उंगली उंगली हमारे नबी की उंगली मुबारक अरे बड़ा हदीस के साथ में लिखा हमारे आका मोहम्मद ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई शहादत ली हमारे नबी ने आसमान की तरफ उठाई अल्लाह ने चांद के दो टुकड़े कर दिए वो तो चांद के दो टुकड़े हुए भी नहीं हुए बोले साथ में बोलो हुए भी नहीं हुए हमारे नबी ने ये उंगली उठाई चांद के दो अल्लाह ने चांद के टुकड़े हुए कि नहीं हुए हमारे नबी ने अपनी उंगली मुबारक उठाई चांद के दो टुकड़े हो गए अरे हमारे नबी ने अपनी उंगली मुबारक सामने की ताकि सामने की दोनों हुआ सूरज सूरज कैसा है डूब गया हमारे नबी ने उंगली मुबारक की उंगली उठाते गए डूबा हुआ सूरज निकलता गया उंगली उठाते गए अरे ये वो उंगली थी जो कभी चांद पर हुकूमत कितना महिमा बोले जो नदी का हाथ प्यारा होगा और नदी का चेहरा कितना प्यारा होगा अरे जिस नदी का तलवा प्यारा बोलो तो जिस नदी का तलवा तो उससे ज्यादा पार मुबारक नहर का पानी तेरे बदन पर उतर रहा है मेरे दोस्तों जिस नदी का पसीना मुबारक है जिस नदी का थूक मुबारक है जिस नदी की उंगली मुबारक जिस नदी का पाव मुबारक जिस नदी के हाथ मुबारक जिस नदी के पाव का तलवा मुबारक मेरे मोल धरा के भाई अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करता हूँ जब नबी के ये सारी चीजें मुबारक है तो चेहरा कितना मुबारक होगा होगा भी नहीं होगा मेरी मान से बोले मैं बोलो मुबारक होगा कि नहीं होगा मैंने बोला था आपको ऐसे धीरे धीरे कहा था बोलते अल्लाह ने मदद बनाया हमारी आवाज में कोई पर्दा नहीं है ये भी समझाना पड़ता है अरे बोलो ना जिस नबी का पाव मुबारक बोलो हाँ जिस नबी का हाथ मुबारक जिस नबी की उंगली मुबारक जिस नबी का थूक मुबारक जिस नबी का जिस नबी का पसीना मुबारक अरे कसम खा कर नबी का चेहरा कितना मुबारक होगा होगा कि नहीं होगा किसी को नबी का चेहरा पसंद है हाथ ऊपर करे तो बात पक्की हो जाए तो चेहरा पसंद है पसंद है इसलिए पसंद होगा तो ही जन्नत मिलेगी वरना अल्लाह की कसम जन्नत नहीं मिलेगी पसंद है नबी का चेहरा पसंद है पूरे मुंजरा को आप नीचे तो माशाला नबी का चेहरा आपको पसंद है मुझे बहुत खुशी हुई लेकिन इतना बताओ नबी के चेहरे पर दाढ़ी थी तुम्हारे चेहरे पे मतलब झूठा झूठा हाथ उठाए गलत तो नहीं बोल रहा अरे गलत बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कह दो चला जाओ चला जाऊंगा लेकिन गलत बोलूंगा तो जाऊंगा सच बोलूंगा तो नहीं जाऊंगा मारोगे तो मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा लेकिन ये बात तो बिल्कुल पक्की आप लोगों ने झूठा हाथ उठाया झूठा हाथ उठाया आपने कहा हाँ आपको नबी के चेहरे से मोहब्बत है सारे तो मेरे प्यारे नबी के चेहरे पे डाली थी पति के चेहरे पे देखो बैठे हो हो हो क्लीन शेर चिकना चिकना दाल लुकिंग हैंडसम लुकिंग स्मार्ट और ये स्नान होकर निकला था ये हमारा हमारा भगत दाढ़ी वाला जब स्नान होकर निकलता है ना तब तो फिर एक ट्यूब लेता ट्यूब यू यू लगा था क्रीम फेयर एंड लवली अब ये यू चौपड़ था यू चौपड़ था अरे अल्लाह का बंदा सौ क्यों खत्म कर दे काला का काला रहेगा बोला कलर को तो कोई नहीं बदल सकता ये बेटे क्या करेगा अरे बोलो ना कहा है ये मेरे को इससे पूछना पड़ता है कि जो चीज ऑटोमेटिक आती है वो तेरे चेहरे पे क्यों नहीं आई औरत को कोई नहीं पूछेगा तेरे चेहरे पे डाली औरत है अल्लाह अल्लाह भाई मेरे को कैसा कैसा पूछता अगर औरत को औरत को सौ साल की हो जाए फिर भी दाढ़ी नहीं आती लेकिन मर्द ऐसा है कि पंद्रह साल का होता है दाढ़ी बारह साल में पंद्रह में तो माशाला बीस साल में तो बहुत माशाला यहाँ मोल धरा नहीं आती यहाँ तो पानी में कुछ खराब नहीं बुरा तो नहीं लग रहा ये मेरे मेरे मेरे को तुम समझा समझाओगे मेरे जैसे मैं मैं अनपढ़ जाए वो क्या समझ पड़े इसलिए मैं आपको पूछता हूँ मौजूदा में आके मैं बहुत अजीब अजीब देखता हूँ कि मर्द को गाली आती है ये फाइनल है औरत को जोर से बोलो औरत को मौजूदा में कोई औरत को आई नहीं आई और आएंगी नहीं और अल्लाह की कारीगिरी में कोई कमी नहीं है अल्लाह ने जैसा हमको बनाया कोई बना सकता अरे देखो नहीं यहाँ अल्लाह ने सही जगह पर दी अगर ये पीछे होती तो अब तो खाली सोचो नाक आगे होता ना आप पीछे होती तो आपने कैसा दिखता है अल्लाह ने कितना अप टू डेट बनाया परफेक्ट अरे कैसा बनाया परफेक्ट अल्लाह ने अल्लाह ने कोई कोई कोई मिस्टेक नहीं की बनाने अरे बोलो मैं मिस्टेक की और अल्लाह ने बनाने के बाद ओपन चैलेंज किया मैंने बनाया चलो किसी सुपर पावर में ताकत हो ब्रेक इंसान तो बना देते कोई बना सका अरे बोलो आज तक कोई इंसान बना सका और अल्लाह ने इतना परफेक्ट बनाया देखो ये दो वोट दिए दिए आप कसम खा के कोई आदमी के सामने खड़े होते सोचो अगर अल्लाह ने दो वोट नहीं देता अगर अल्लाह ने दो वोट नहीं देता तो सामने क्या नजर आते जैसा भूत जैसा दिखता जिन्ना को ढूंढना ही नहीं पड़ता घर में जिन्ना पैदा होता अरे सही में ये वोट नहीं होते तो कैसा दिखता आदमी सोचो ना कैसा दिखता कभी आप अपने होट को ऊपर नीचे करो फिर आईने के सामने करो आपको अपनी नजर लगती है अरे होता नहीं है इसलिए अल्लाह ने फरमाया अलम अल्लाह फरमाते मेरी देख ले तो आंखें तुझे दे दी अगर दे लू तो कोई तुझे वापस नहीं कर सकता जबान दे दी दो और दे दिए और अल्लाह कहते मैंने बताया मेरी तरफ कोई नहीं बना सकता तो अल्लाह की कारीगिरी में कोई गलती बोलो ना कोई गलती कोई मिस्टेक कोई शक कोई शुभा अल्लाह ने परफेक्ट एक्यूरेट प्योर अल्लाह एक और जगह पर लगा मुझे भाई ने कहा में मैं सापुतारा जाता मैंने कहा बोला था सबको कहा कि वो सूरज डूबता है वो देखने का है मैंने कैसा लगता है तो बहुत खूबसूरत दिखता है मैंने कहा उससे ज्यादा खूबसूरत तो क्यों कहते क्या मौलाना ने कहा इतना खूबसूरत मैंने कहा कुरान कहता है वो बाद में खूबसूरत तुम ज्यादा खूबसूरत है कुरान में कहा पहाड़ खूबसूरत है सूरज खूबसूरत है जमीन खूबसूरत है चांद खूबसूरत है सितारा खूबसूरत है लेकिन कुरान कहता वो सब खूबसूरत है तू सबसे ज्यादा खूबसूरत है अरे देखे नहीं बोलो ना अल्लाह ने हमारे बनाने में कोई गलती की अभी भी तो पूरा मजमा नहीं बोल रहा बोलो बनाने में गलती की बनाने में गलती की बिल्कुल नहीं सुनने के लिए तो सारी औरतें कहीं अल्लाह का हो बाहर आप अभी आगे बढ़ो इन्हें बाहर करो तो मर्दों में से भी बाहर निकला औरतों में से भी बाहर निकला कहा जाएगा मैं कुछ नहीं एक मरतबा मैंने ऐसा बयान किया ना यहाँ तो पहली मरतबा बोला आप लोग नाराज तो नहीं हो ना लेकिन एक मरतबा एक जगह में बयान किया तो एक आदमी बहुत नाराज हो गया बहुत नाराज हो गया मुझे क्या कहता बोला ना कि जगह बोलता है मैंने कहा ना मैं नहीं बोला मैं बोला अरे बोलो मैं बोला मेरे से अच्छा समझने वाला कोई नहीं तो इतना गुस्से में वो तो गुस्से में था ही इतना मौलाना गुस्से हुआ और गुस्से गुस्से में मेरे को क्या बोलता मालूम ए मौलाना इंसल्ट कर दिया तुमने क्या कर दिया यहाँ भी बहुत सारी सोचते होंगे इंसल्ट हो गई मैंने कहा हाँ मैंने कहा उस मैं भी ठंडा पड़ा मैंने कहा हाँ इंसल्ट किया क्यों किया मालूम मैं दस मिनट बोला तेरी इंसल्ट मैं कितने मिनट बोला मैंने कहा तेरी उम्र की कितनी पच्चीस उसने कितनी उम्र बताई मैंने कहा पंद्रह साल की उम्र में तेरे को दाढ़ी आ गई अभी पैंतीस साल में भी तेरे चेहरे पर बाल नहीं होंगे कितने साल हो गए बोलो कितने साल हो गए मैंने कहा मैं दस मिनट बोलूँ तो तेरी इंसल्ट और तू बीस साल से मदीने वाले की इंसल्ट करता हूँ उसका कौन जवाब देगा वो जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं उनको पूछना चाहता हूँ कि मैं दस मिनट बोला तो तेरी इंसल्ट हो गई हम हाँ, दस मिनट ओनली टेन मिनट मैं तेरे सामने बोलूँ तो तेरी इंसल्ट हो जाए और तू बीस साल से मदीने वाले की इंसल्ट करता है इसलिए कि हर पीर हर जुमेरा तेरा चेहरा नबी के रोजे में पेश किया जाता है तेरा अमल नबी के रोजे में हमारे नबी 20 साल से यही देख रहे हैं कि इसको यहूदी का चेहरा पसंद आया क्या कसूर था मेरा कि मेरा चेहरा आज तक इसको पसंद नहीं आया अरे मेरा प्यारा तू ये रेजर चलाता ना चला चला चला कौन मना करेगा तुझे चला रेजर चला ब्लेड चला कैंची चला लेकिन अपने दिल की गहराई और अपने दिल के ईमान से पूछ के रेजर चलता है तेरे चेहरे पर लगता है नबी के दिल पर ये रेजर तू यहाँ चला था या मैं कभी बोलता हूँ यहाँ चला चला चला हाथ से चला यहाँ से फूट टपकना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्तों जब चलता है तेरे चेहरे पर और लगता होगा नबी के दिल पर तो नबी के दिल को खून करने के लिए तो उम्मीद ही बना है ही क्यों बना है इसीलिए बना है नबी ने क्या बिगाड़ा था अरे बोलो मेरे प्यारों को बिगाड़ा था हमारा मेरे प्यारों हमारे जवान आज ये दाढ़ी नहीं करते नहीं रखते मैं ये पूछूंगा इनसे क्यों नहीं रखते इतना तो बोलोगे ना चलो मैं और कुछ नहीं बोलता वो मैंने जो बोला वो वापस ले लेता चलो ठीक है आप लोग नाराज न हो लेकिन ये बताओ कि क्यों नहीं रखते अरे बताओ ना भाई वो सुलेमान मैंने रास्ता खाना खिलाया ऐसा नहीं हो कि तुम बताओगे तो सुबह का नाश्ता भी कराना पड़ेगा अरे बोलो क्यों नहीं मैं आपको जवाब दे दू जवाब दे दू आप लोग इससे दाढ़ी नहीं रखते वो क्या बोलेगी बिल्कुल चौथे शब्दों में मैंने बता दिया अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं समझ गए वो ज्ञान सही नहीं हाँ, हाँ, जवाब माफ करना मेरा माफ करना क्या जिंदगी है हमारी पूछो पूछो ना कभी कभी अकेले बैठ मेरे जवान कभी अकेले घर में जाके बैठ और ये कि ये, कौन सी जिंदगी है ये कौन सी जिंदगी है कि किसी को खुश करने के लिए तुमने नबी के चेहरे से दुश्मनी कर ली अच्छा वो क्या बोलेगी उसके टेंशन में तू दाढ़ी नहीं रखता तो जो बोलने वाली है उसको पूछ तू कबर में आएगी कबर के साथ आएगी क्या है मेरे दोस्तों हमारा जवान अजीब मामला मौलाना सिंगा हमारे जवान का भाई आप लोग देखो नाराज होते होंगे मुझे मालूम है आप नाराज होते होंगे लेकिन क्या करो हक बात बोले तो कड़वी लगती है सही ना डॉक्टर इंजेक्शन मारता है तो अच्छा लगता है अरे बोलो ना अच्छा लगता है डॉक्टर कड़वी कड़वी दवा देता है अच्छा लगता है लेकिन डॉक्टर को फीस भी देते हो मेरे को तो कोई नहीं देगा अरे कोई देगा अरे मुलाकात करेगा असला मौलाना जाकू कब पहुंचा आपको क्या लेना देना तुमसे डॉक्टर को इतना बड़ा बड़ा ऑपरेशन करेगा पूरा कार्ड देगा चीर देगा आईसीयू रूम में रखेगा और सवा लाख का बिल तो सवा लाख का बिल भी देगा साथ में मिठाई का डब्बा भी देगा अरे होता नहीं होता देखो मेरे दोस्तों मेरी बात सुनो हमारा जवान क्या करता है साथ में बोलो हमारा जवान ये ये कोई जिंदगी है मेरे दोस्तों अच्छा मोबाइल मोबाइल मोबाइल मालूम है ना मोबाइल जानते हो आप लोग अरे बोलो मैं जानते हो मोबाइल जानते हो ना आप लोग हर एक चीज में मोबाइल मैं मोबाइल रखने को मना नहीं करता रख रख मोबाइल का अरे जलवा पड़े तो एक नहीं दस मोबाइल कितने रख मैं मोबाइल रखने को मना नहीं करता लेकिन ये बता कि तूने जो मोबाइल रखा है उसकी जरूरत है जरूरत किसको पड़े जो कोई काम करता हो अरे दीन का काम करता हो उसको भी मोबाइल की जरूरत पड़े कोई दुनिया का काम करता हो उसको भी मोबाइल की उसको हाफिज होगा काली होगा आलिम होगा उसको मोबाइल की जरूरत पड़ेगी या कोई डॉक्टर होगा बैरिस्टर होगा वकील होगा लॉयर होगा कॉन्ट्रेक्टर होगा आर्किटेक्ट होगा दीन की डिग्री होगी दुनिया की डिग्री होगी तो जेब में मोबाइल मेरे जवान को पूछ तू क्या कहता है तू क्या कहता है माना हो गया कुरान पढ़ा नहीं रमजान में भी कुरान पढ़ा नहीं होगा बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ चलो मेरे पास दीन नहीं हमारे जवान को करो इसमें डॉक्टर बोले वकील बोले सेंटर बोले लॉयर बोले बोले बोले है अरे वो आदमी में फेल हो गया उसके बाद में आगे नहीं बढ़ा मतलब दीन भी नहीं और, और जेल में पच्चीस हजार का मोबाइल जहाँ नया पीस आया पहले तेरे जेब में अरे बोलो होता ही नहीं होता अरे साहब तो मोबाइल मोबाइल को तो समझता है कि मोबाइल की वजह से तेरा कुछ इज्जत कर गई अरे मोबाइल से इज्जत कर गई जब मोबाइल जाके कहा मोबाइल मोबाइल मोबाइल अरे वो बेचारा हमारा बाप है ना हमारा बाप समझता मेरा बेटा सो गया मैंने कहा मेरा बेटा सोया नहीं वो उसके कमरे में मोबाइल में खो गया रात को बैठे बैठे भी सोच गया एक तो पहले रात को बाहर बैठेगा दो बजे ढाई बजे तीन बजे तक उसके बाद बाहर घर पे जाएगा फिर भी नींद नहीं आएगी तो मिस कॉल करेगा I love you I love you I love you और वहां से भी अगर जवाब आ गया आई लव यू तब तो बेचारे की नींद हरा हो गया पूरा दिन मोबाइल पूरा पूरा दिन मोबाइल अल्लाह पर अरे तू हाफिज होता तू मुफ्ती होता कोई तेरे को बतवा पूछता तू कारी होता तो तू मोबाइल दस रखता तो आखिरी दर्जे का अनपढ़ ही नहीं तेरे पास तो दीन भी नहीं दुनिया भी नहीं दुनिया का कोई हुनर तुझे नहीं आता दीन तुझे समझ में नहीं आता और क्या करेगा बाबू क्या करेगा हाँ हमारा ये जवान फजर की नमाज में नहीं दिखेगा दिखता है ना अंकल तो गाँव में शादी हो गई तो वहां अरे बोलो दिखता नहीं ओहो उस वक्त इसका टी शर्ट देखने का ओह ऐसा लगता है वो सारे खान नकली असल तो मुल्तान में पैसा हुआ इसका टी शर्ट देखो इसकी जीप देखो इसका जूता देखो इसका पौधा देखो इसके बाल की साइज देखो और हाथ में मोबाइल और जहाँ होटल आती होगी वही में भाई बन जाता होगा जहाँ आती होगी वही ऐसे इंग्लिश भी साथ नहीं होगी दो चार मुझे उसको डाल एक ब्रेक भाई ने एकदम मोबाइल उठाया तो मुझे किसी ने कहा कि बोला ना ये तो घंटी भी नहीं बची अचानक इससे मोबाइल पर बात करना शुरू की मैंने कहा है बोल जरा का है भाई का फोन आया होगा ऊंचे ऊंचे ये क्या है मेरे दोस्तों ये ये ये सब दिखाने से क्या मिलता बोलो सबको हकीकत मालूम है फिर काय को दिखावा करते हो हाँ, हाँ, अभी मालूम नहीं क्या आपके मुंजरा भी नहीं हुआ होगा अल्लाह मेरे कभी हो भी नहीं मैंने सूरत में भाई को देखा मौलाना जींस पहना था जींस ओके इस पे ना मालूम मेरी ऑपरेट चक्रा गई इधर लाइट ब्लू इधर डार्क ब्लू समझे लाइट ब्लू डार्क ब्लू समझते हो यानी यहाँ ब्लू कलर लेकिन बिल्कुल छाका रखा और यहाँ देखो तो एकदम खड़ा खड़ा कलर फिर यहाँ मैंने देखा तो उसका घुटना फटा हुआ और हाँ, यहाँ पर एक लाइन दो लाइन ये पूरा घुटना और दिल बना हुआ इधर अरे पूरी दुनिया का दिल इधर होते इसका पिंडी में दिख जाते तो मैं अच्छा वो मेरे सामने बात करना बड़ी बड़ी बातें करा काली साहब ऐसा हुआ काली साहब ऐसा हुआ अब मेरे को उसकी नहीं सुनो मेरे तो उसकी तो पठोनत देखो अब मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही कि खड़ा उतरे तो पूरा उतरे आधा उतरा आधा नहीं उतरा और दूसरा जो फटा हुआ तो हर जगह फटा हुआ उनने से जगह को फटा और दिन पूरी दुनिया का इधर उधर इधर बिल्ली का अब मैं परेशान मैं उससे क्या क्या बात बोला मेरे को समझ तो मैंने कहा सब बात पर छोड़ जाते मेरे घर का पटलोन उल्टी पहन के आया सीधी पहन के आया तो रिव्यू दिखता है हो रिव्यू दिखता है ओके इस ओके मैंने कहा ओके ओके क्या ये देख लेंगे क्या मेरा हाल हो गया तेरी पटलून का तो कहता है मौलाना तुम लोग को नहीं मानो तुम लोग मुल्ला लोग ना तुम लोग मुल्ला लोग मस्जिद नगर मस्जिद नगर तुमको समझ नहीं पड़े ये तो उसने कोई मैं हीरो का नाम भूल गया था कोई पिक्चर में हीरो है उसने ऐसा पहना तो हमारे जवानों ने भी ऐसा पहनना बोलो बोलो हीरो ने पहना तो हमारे जवानों ने भी पहनना मैंने उसको कहा अच्छा हुआ उसने पहना वो नहीं पहना होता तो अरे समझे नहीं समझे भाई ये क्या है ये कौन सा ईमान है कि उसने पहना था हमने पहना पहले वो नंगा मिला तू भी नंगा मिला हम उस पर ईमानदार है हम उस पर ईमानदार है हमारा ईमान उस पर है हमारा ईमान उस रसूल पर है जो हमारे वास्ते रातों को रोना करता था उस रसूल पर है जो अपने पाप को लहू लुहान किया करता था उस रसूल पर है जो अपने दांत मुबारक को शहीद किया करता था उस रसूल पर है जिसकी बेटी भी पेट पर पत्थर बनता करती थी मैंने दोस्तों उस रसूल को भूलकर इतना बेशरम उस पर हाँ, जरा वो वो पहना तो हमने भी पहना मैंने देखा देखो मैं आज आपको एक बात कह रहा हूँ बात खत्म करने जा रहा हूँ आपको ज्यादा नाराज मत मैं बात खत्म करने जा रहा हूँ लेकिन एक बात आपको कहूंगा एक इजाजत एक बात कहने की इजाजत है अरे बोलो ना तो एक बात की इजाजत है मैं सिर्फ आज आपको एक काम देखती सिर्फ मोलधरा में पहली मतलब आया फर्स्ट टाइम फर्स्ट लेसन बोलो फर्स्ट टाइम तो पहली मरतब आया तो मैं एक ही सबक आपको सिखाऊंगा और सिखाऊंगा क्या मैं खुद भी सीखूंगा ऐसा नहीं कि मैं सीख गया तो मुझे भी सीखना है आपको भी सीखना है बताओ कौन कौन तैयार है इसके लिए एक पहला लेसन आप पढ़ेंगे आप नाराज तो नहीं है मुझसे नाराज तो नहीं है आज मैं आपको सिर्फ एक सबक देखे जा रहा हूँ आहिस्ता बोल कर आऊंगा बुलाओगे अब तो अंदर से बोलता हूँ तू कब उठे वो सोचता कौन कौन तैयार होता है मेरा एक एक सबक याद करने के लिए कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे माशाला और मुझे उम्मीद है मेरा बोल तरह का भाई बुरा मत मानना बुरा मैं मैं कुर्सी पर भले बैठा हूँ लेकिन आपके सामने खुल के कहता हूँ कि बुरा बोलो बुरा मैं हूँ हूँ इसमें कोई मुझे शर्म नहीं थी बुरा हूँ क्यों बुरा हूँ मालूम है इसलिए कि तो तुमने आप खोली तुमने कलमा पढ़ा पढ़ा तुम्हारी माँ ने बोलो बोलो कलमा पढ़ा तुम्हारे अब्बा ने मैंने जिस घर में आँख खोली वहां ईमान नहीं थी तो बुरा नहीं हुआ ना अरे बुरा नहीं हुआ ना इसलिए आपको घर बैठे अल्लाह ने ईमान दिया हमको तो बहुत बात नहीं मान लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ बुरा हूँ फिर भी समझाता हूँ मेरा प्यारा देख मौत आ जाएगी ना मौत आएगी ना एक बार आंख बंद हो जाएगी कबर में चला जाएगा फिर कयामत में इंसान की तब बहुत मुश्किल हो जाएगा अरे होगा कि नहीं होगा अब मरना है कि नहीं बोलो मरना है कि नहीं मरना है मरना है सबको मरना है ये मैं कुर्सी पर बैठा कोई गारंटी नहीं उठूंगा कि नहीं उठूंगा आप आज रात में हो कोई गारंटी नहीं सुबह तक कौन जिएगा कौन मरेगा मेरे दोस्तों मौत आने से पहले एक काम मैं तो कहता हूँ एक काम के लिए तैयार हो जा बाकी काम अल्लाह करवाएगा अरे बोलो बाकी काम कौन करवाएगा अल्लाह करवाएगा मैं सिर्फ एक काम बताता हूँ और आपने हाथ उठाकर मुझे बहुत खुश कर दिया आप लोग करोगे एक काम करोगे इंशाला क्या काम करना है मालूम आज से तय कर ले चलो तुम जैसे जिंदगी गुजारता है गुजार मैं कहता हूँ मैं एक काम कर ले बाकी काम अल्लाह खुद करवाएगा बाकी काम अल्लाह मेरे सारे मोलधरा के जवान और करीब से आने वाले जवान एक काम के लिए तैयार हो जा कि इंशाला कल की फजर से लेकर कल की फजर से लेकर मौत की शाम तक मेरी नमाज कजा नहीं होगी इंशाला जवान तय करने पढ़ूंगा नमाज पढ़ूंगा इंशाला दिल के दिल के जज्बे से दिल की गहराई में एक जवान है मुसलमान है अब जवान अपनी बात में पक्का होता है मुसलमान अपने इरादे में पक्का होता है आप दिलो जान से इरादा कर ले कुछ भी होता है लेकिन कल की फजर से लेकर मेरी मौत की शाम ऐसी होगी कि मेरी एक भी नमाज का दादी होगी कौन कौन इसके लिए तैयार है हाथ कौन कौन भैया अगर आप तैयार है तो मैं बता दूं नमाज पढ़ने पे क्या मिलेगा और न पढ़ने पर क्या मिलेगा उसके बाद बात खत्म कर दूंगा आप लोग तैयार इतना सुनने के लिए तो तैयार हो पढ़ने पर क्या मिलेगा और न पढ़ने पर क्या बर्बादी आ गई सब लोग तैयार इतना सुनने के लिए मैं पहले आपको ये बताऊं ये आपको बताऊं कि पढ़ने पर क्या मिलेगा पढ़ेंगे नहीं इन सुनो पढ़ने पर क्या मिलेगा हदीस से बात में लिखा है वो लड़की बात पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह हदीस के बाद में लिखा है कि नमाज पढ़ने पर क्या मिलेगा और न पढ़ने पर भाई सुनोगे ना सुनोगे नहीं इंशाल्लाह और वो कौन कौन अमल करेगा हाथ ऊपर करेगा अमल कौन कौन करेगा करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँ सुनो बिल्कुल कुरान कुरान को सामने रखा ना कयामत का दिन होगा बोलो कयामत आएगी कि नहीं आएगी नहीं आप अपने जल्दी जल्दी बोले वक्त खत्म करें हम हाँ बोलो कयामत आएगी कि नहीं आएगी हाँ कयामत आएगी ये तो चौकस एक सौ एक परसेंट कयामत आए लेकिन कयामत में क्या होगा मालूम एक वक्त ऐसा आएगा अब लोग कयामत के मैदान में अब लोग पूरा मैदान बचा कर जवाब अल्लाह ताला आएंगे बोलो कौन आएंगे अल्लाह ताला आएंगे और अल्लाह ताला आकर क्या कहेंगे या इबादी उस ने अल्लाह कहेंगे आओ मेरे बंदो आओ चलो आओ मुझे सज्जा करो आओ मेरे बंदे आओ मुझे सुना जो नमाजी होंगे ना पक्के नमाजी पांच पक्के नमाजी भाग भाग भाग भाग चारों तरफ से आएंगे और आकर सीधे अल्लाह को सज्जा करेंगे जैसे अल्लाह को सज्जा करेंगे अल्लाह कहेंगे हाँ हाँ मेरे बंदे मैं तुम्हारी पेशानी पहचानता हूँ तो दुनिया में भी मेरे सामने फजर में ठुका जोहर में ठुका अजहर में ठुका मगरी में ठुका ईशा में ठुका तू नमाजों में ठुका करता था मैं तेरी पेशानी पेशानी पहचानता हूँ मेरे बंदे उठ जा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में अपनी जन्नत में कैसे जगह मानो वो मेरे जवान सुनो नमाज हम लोग चाहते हैं कि हमारी इज्जत होए नमाज पढ़ ले अल्लाह कयामत में ऐसी इज्जत देगा जो किसी को भी नहीं देगा नमाजी जन्नत में कैसे जाएगा अल्लाह कहेंगे उठ उठ उठ उठ उठ जा जन्नत में जा जन्नत वो नमाज उठेगा पहला अल्लाह कहा है जन्नत का अल्लाह कहेंगे सीधा निकल सीधा यहाँ से चल जन्नत और जन्नत में फिर इसलिए कि तू नमाज पढ़ता था नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं मेरी जन्नत फिर से बढ़ के कोई जन्नत नहीं जा जा जा तो नमाजी उठेगा ना और यू देखेगा जैसे जन्नत को देखेगा ठंडी ठंडी हवा के झोंके अरे आज का एयर कंडीशन भी फेल हो जाती है अरे एयर कंडीशन दुनिया का क्या चले वो अल्लाह का एयर कंडीशन चलेगा ठंडी ठंडी हवा के झोंके और अल्लाह के लिए जा बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ देख आगे जन्नत से बढ़ आगे बढ़ वो जैसे नमाजी आगे बढ़ेगा चारों तरफ से फरिश्ते सलाम सलाम सलाम सलाम अरे वो नमाजी को देखेगा आज तो देखो अल्लाह ने क्या इज्जत दी है सारे फरिश्ते मेरे को सलाम करते हैं और ये बताओ फरिश्तों की आवाज कैसी होगी अरे बोलो ना फरिश्तों की आवाज कौन कौन नमाज ही उठेगा कहा जा रहा है साथ में बोलो कहा जा रहा है कौन सी जगह में जा रहा है जन्नत कैसा उठेगा हाँ अभी से पाक में देना मैंने भी करी इनसे वसल्लम ने फरमाया नमाजी उठेगा कयामत के मैदान में उठेगा और वो नमाज नमाजी जन्नत की तरफ जाएगा जन्नत की फिटोर की तरफ जाएगा चारों तरफ से फरिश्ते उठे बोलो ना पूरा मजमा बोले चारों तरफ से फरिश्ते उठे सलाम जन्नत का दरवाजा बंद है तो दूसरे को कहेगा ये बंद है दरवाजा तो बंद है अभी तो कहेगा बंद है कि अल्लाह उसको खोल दे बोलो सुबह अल्लाह से खुद ही खाता हुआ हुआ अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोलेगा नमाजी जा रहा है बिल्कुल जन्नत के दरवाजे बोलो कहां पर आ गए जन्नत के जैसे दरवाजे पर आएगा फरिश्ते सलाम करना बंद फरिश्तों का सलाम करना तो नमाजी को भी हिम्मत आई है जन्नत के दरवाजे पर खड़े हो कहेगा अल्लाह मेरा सलाम नहीं करते अभी तक करते थे अल्लाह अभी तक करते थे अभी सलाम नहीं करते ये लोग सलाम करते थे मेरे को बहुत अच्छा लगता था अल्लाह इन्होंने सलाम बंद कर दिया अल्लाह की आवाज आई हाँ मेरे बंदे तू के दरवाजे में है तू होकर है अब तुझे कोई सलाम नहीं करेगा में अब तेरा पैदा करने वाला खुदा तुझे सलाम करेगा अब कोई सलाम नहीं करेगा कौन सलाम करेगा और सूर्य यासीन में लिखा कौन सलाम करेगा अल्लाह क्या फरमाया सलाम करेगा अल्लाह और लिखा जैसे अल्लाह सलाम करेगा मेरे दोस्त अल्लाह का सलाम कैसा होगा अल्लाह जैसे सलाम करेगा ना वो नमाजी दरवाजे पर ही बैठ जाएगा जन्नत के साथ अल्लाह के अंदर तो आप अल्लाह तेरे सलाम में मुझे जन्नत नजर आ गई लेकिन अल्लाह अंदर बुलाएगा और फिर क्या शान होगी वो तो और हदीस में लिखा हुआ लेकिन इतनी बात है कि नमाजी कहाँ पर जाएगा चलो अब आ जाओ नमाजी का क्या बे नमाजी जो लोग हम लोग हम लोग मुड़ में आना तो पड़ेगा मुड़ भी नहीं आना तो नजर कभी नहीं पड़ा मगरी कह रहा कभी ईशा में आया तो आया कभी नहीं आया इधर तो होता भी नहीं होता पहले कुछ लोग आए सज्जा किए कहाँ चले गए लेकिन जो हो गए कभी पढ़ता कभी नहीं पढ़ता वो अभी आएंगे दूसरे नंबर पे आएगा अल्लाह कहिए सत्ता पर सज्जा कर देख वो लोग सत्ता के जन्नत में चले गए आप हाँ, तुम भी सत्ता पर लिखा है जो बेनमाजी होगा वो सत्ता करने जाएगा चाहेगा तो सिर्फ लेकिन अल्लाह ऐसा ऑपरेशन करेगा उसकी कमर में अल्लाह लोहा रखेगा ये जो कमर है ना यहाँ अल्लाह लोहे की प्लेट रखेगा और लिखा है वो प्लेट अल्लाह लोहे की रखेगा जिसको अल्लाह ने जहन्नम में तीन हजार साल को तो गर्म किया होगा थ्री थाउजेंड ईयर अल्लाह ने जो लोहे की फ्लैट प्लेट होगी ना वो अल्लाह अरे आज का डॉक्टर ऑपरेशन करता तो घंटे निकाल कर अल्लाह तबारक बताना का मामला कोई भय कोई तो, कोई हाँ बस सीधे वो लोहा कवर में आ जाएगा तीन और मेरे दोस्तों अरे मोमबत्ती में उंगली डालो तो उंगली जलती जलती ना तो लोहा कैसा जलता होगा अल्लाह हिफाजत करे तीन हजार साल जहनम में गर्म किया और अल्लाह कहिए सज्जा कर सज्जा कर देखो लोग जन्नत में गए आ जाओ सज्जा कर तो सज्जा करने जाएगा लेकिन जैसा इतना बोलेगा कि ऐसी आग लगी जो खड़ा हो जाएगा कहेगा अल्लाह बहुत जलता अल्लाह रोएगा चीखेगा चिंताएगा अल्लाह बहुत रो बहुत जलता और फिर क्या कहेगा अल्लाह मेरे से सज्जा नहीं होता अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे सज्जा होता नहीं मैं करने भी नहीं होता अल्लाह कहते तू ये क्या कहता कि सदका होता नहीं मैं करने भी नहीं दूंगा अल्लाह भविष्य को कहेंगे ये दुनिया में मेरे सामने नहीं झुकता था आज मैं इसको अपने सामने झुकने नहीं दूंगा अल्लाह भविष्य को कहेंगे मेरी इज्जत और जलाल की कसम इसको जहन में फेंक दो इसको कहां पर फेंक दो अरे बोलो मेरे कहां पर फेंक दो किसको जिसने नमाज कभी पढ़ी पर कभी अच्छा ये मैंने कहता ये कुरान में लिखा है पारा नंबर उनतीस सूर्य कलम रुकू नंबर दो इतना सुनकर मैंने आपको बताया पारा नंबर उनतीस सूर्य कलम रुको नंबर और मैं पढ़ के बताऊं अल्लाह कयामत में क्या करेंगे सुनो अल्लाह हाँ मैंने कहा ना कयामत में सब लोग जमा होंगे कौन आएंगे अरे बोलो ना कौन आएंगे अल्लाह कौन आएंगे कुरान में लिखा शुआ बेनमाजी कहा जाएगा बोलो बोलो बेनमाजी कहा जाएगा और ये कौन कहता मैं नहीं कहता अल्लाह कहता और अल्लाह के वादे को कोई फर्क नहीं सकता बल्कि एक बात पता के बाद खत्म कर दूँ पढ़ोगे नमाज पढ़ोगे नहीं मेरे प्यारे ऐसे दिल से बोलो नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह कोई जबरदस्ती नहीं बोलो दिल से पढ़ोगे तो नमाज इंशाल्लाह एक आयत बताता हूँ ये आयत मैंने बहुत जगह पर बताई सुनना मौलाना ये आयत मैंने बहुत जगह पर बताई वहाँ से लोगों का फोन भी आया कि मौलाना ये सुनने के बाद तो अब तो नमाज छोड़ने की हिम्मत ही नहीं वो आए मैं आपको भी बता दूर बता दू कुरान में लिखा बारह नंबर सात में आपको हवाला दे रहा हूँ बारह नंबर अल्लाह गुस्से में ओ मेरे क्या अल्लाह गुस्से में क्या फरमाते नमाज छोड़ेगा जब अल्लाह फरमाते नमाज छोड़ेगा देख तो याद रख बहुत छोड़ेगा ना एक चीज उसको बेटा बना दूंगा एक दिन कुछ हो अल्लाह कहते बहरा बना दूंगा लेकिन अल्लाह का गुस्सा भी तो कहते नहीं नहीं नहीं अल्लाह आगे कहते नहीं बहरा नहीं बनाऊंगा तू नमाज छोड़ेगा ना अल्लाह बना दूंगा फिर आगे अल्लाह कहते नहीं गुस्सा भी बहुत करना अल्लाह कहते नहीं नहीं अल्लाह नहीं बनाऊंगा लेकिन मेरे बंदे नमाज छोड़ेगा ना मैं कसम खाकर कहता हूँ मौत क्या वो तेरा ईमान छीन लूंगा और आगे अल्लाह कहते हैं मैं छीन लूंगा कोई तुझे वापस नहीं ले सकता दुनिया की निगाह में मुसलमान का मेरी निगाह में तेरा ईमान नहीं होगा पुनः मेरे मन करा के भाई फैसला तो आपको करना है तो चलाता होगा मैंने ये जो बात बताई कुरान में लिखी है पारा नंबर मेरी सब बोलो पारा नंबर ताकि आप भी तो देख सको ना अल्लाह ने फरमाया है ना पारा नंबर साथ में तेरा बहरा बना दूंगा अल्लाह के नाम अल्लाह बना दूंगा अल्लाह के नाम मेरा गुस्सा बहुत है अगर तू बार बार नमाज छोड़ेगा मौत के होती ईमान जीत लूंगा और मैं ले लूंगा दुनिया की कोई ताकत मेरे ईमान वापस नहीं कर सकती इसलिए मेरे दोस्तों बताओ कौन कौन नमाज पढ़ेगा ईमान के साथ और नमाज कौन कौन पढ़ेगा भाई तो पढ़ेंगे इन शाह इन मेरा कैसे खुश कर दिया मैं कसम खाकर कहता हूँ रसूल भी खुश हो गया अल्लाह भी राजी हो गया होगा मेरा बंदा अरे सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए उसे भटका हुआ नहीं कहते एक बार फिर तैयारी कर ले आज से मेरा परवर दिला तुझे राजी करूंगा अब गुना नहीं करूंगा ए अल्लाह मैं तुझे राजी करूंगा मैं पाँच अपनी नमाज पढ़ूंगा और अल्लाह गुरु कहते नमाज पढ़ने बाकी सब मैं बना दूंगा बाकी कौन बनाएगा एक बार बताओ हजरत उमर थे ना हजरत उमर वो तो मिम्बर पर खड़े होते थे जुमा के लिए मिम्बर पर क्या कहते थे दोस्ती करना है नमाजी से कर हजरत उमर कहते थे दोस्ती करना है नमाजी से कर हे नमाजी से दोस्ती मत करना जो खुदा को धोखा देता होगा तुझे कभी भी धोखा दे देता हजरत उमर में कुछ तो कोई कोई तो मकसद होगा ना हजरत उमर का इतने बड़े शख्स ऐसा बोले हजरत उमर कौन थे हमारे नबी फरमाते थे मेरे पास कोई नबी नहीं बोलो हमारे नबी फरमाते थे मेरे पास लेकिन फरमाते थे अगर मेरे पास कोई नबी होता तो अल्लाह उमर को नबी बनाता लेकिन मेरे पास कोई नबी वो हजरत उमर कहते हैं कि मैं नमाजी से दोस्ती मत करना वो खुदा को धोखा दे सकता वो तुझे भी धोखा देगा इसलिए मेरे प्यारों मैं मौलिक में पहली मरतब आया इससे मैंने कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं की और जो थोड़ा बहुत था वो तो बहुत थोड़ा था आपको तो लगता होगा बहुत बोल के जा रहा है लेकिन बहुत बोल के नहीं जा रहा हूँ दूसरी मरतबा बुलाओ तो मालूम पड़ेगा बहुत कितना बोल रहा हूँ अरे बात समझ में कि नहीं आज तो पहली मरतबा है बिल्कुल सीधा सीधा एक ही बात कहता हूँ नमाज पढ़ोगे ना मेरे प्यार बोलो नमाज पढ़ोगे और मैंने देखता तो आपको कहा नमाज ही बन जाओ जन्नत फिरदौस वाला बन जाओ बोलो नमाज ही बन जाओ कहते कुरान में अठारहवा पार कुरान में पंद्रह पार अठारहवीं पारी का पहला पेज उसमें अल्लाह फरमाते हैं तैयार तो हुए फिर फिर मरतबा बोलो तो पर तैयार सबसे कब से शुरू करोगे मैंने सोच कल की कब तक पढ़ोगे मौत की कोशिश करो बच्ची में पढ़ो कभी में पढ़ो अल्लाह ने बहुत वक्त दिया है हमारा जवान रोटी पर बैठता है देखता है कि सब लोग नमाज पढ़ने जाते फिर भी नहीं आता अब क्या बोले बोल तू जा तुझा वहाँ आओ बची आओ तू जा बोलता नहीं बोलता तुझा तुझा तुझा वहाँ आओ बची मेरे दोस्तों ये जुमला इतना खतरनाक है अल्लाह आसमान से कहता होगा तू क्या आएगा तुझे तो मैंने ऐसा मालूम कर दिया कि तू मेरे घर की सीढ़ी चढ़ना भी नसीब न करो वो इतना आराम से बता तू जा तू जाओ आओ हो बजी आओ हाँ तू जा तू नमक पड़ो अरे अल्लाह का बंदा तू मुसलमान नहीं ये ये तो मुनाफिक मदीने में जो मुनाफिक थे ना जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने जाता था तो जिसके दिल में ईमान नहीं होता तो वो कहता था जाओ जाओ नमाज पढ़ो हम बाद में आके नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ने कहा ये जहनमी अल्लाह ने कहा ये और कौन सा जहनम ये आखिरी जहनम का जो तबका चलता होगा ना जिसमें खून और पीट पिलाया जाता होगा मैं उसमें इसको रखने वाला हूँ अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए मुझे लगता है मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं अब इतनी बात बोलने के बाद भी अगर अल्लाह समझ में आए तो उससे बढ़ रहा है देखो अल्लाह ने नमाज माफ किया अरे बोलो माफ किया हर हाँ जी माफ पैसा नहीं है अल्लाह ने कहा मत कर कहा अल्लाह बहुत बुरा हो गया का रोजा मत रख बोलो बोलो अल्लाह पैसा नहीं है अल्लाह सदका न दे नमाज माफ किया कहा अल्लाह पाओ बहुत उठता है अल्लाह ने कहा बैठ पढ़े ये भी कहा मत पढ़ अल्लाह ने कहा मत पढ़ कहा खड़े होके पढ़ अल्लाह पाओ बहुत उठता है कहा बैठ पढ़ कहा अल्लाह बैठे भी नहीं जाता कहा लेट के पढ़ कैसा पढ़ कहा अल्लाह लेट के पढ़ता हूँ तो रुकू समझा तो होता ही नहीं इतने बिस्तर पे सोया तो रुकू था अल्लाह ने कहा मत कर आपसे इशारा कर लेकर रुकू समझा कबूल कर अल्लाह पानी भी तो नहीं है अल्लाह वजू नहीं करूंगा तो बिना अल्लाह ने कहा दीवार है ना दीवार के हाथ मार तयमो कर लेकिन नमाज पढ़ नमाज को माफ नहीं करता सोचो अल्लाह ने नमाज को कैसे खड़े पढ़ नहीं बैठे पढ़ नहीं लेटे पढ़ नहीं इशारे से पढ़ नहीं साफ पानी नहीं का तयमो कर लेकिन नमाज को मैं माफ नहीं करूंगा मेरे दोस्त कुरान नदी को उठाकर देखो अल्लाह ने नमाज को माफ नहीं किया माफ किया तो सिर्फ दो से माफ कर दिया अल्लाह ने नमाज माफ की कितने से एक छोटा बच्चा जो बारिश नहीं होता है पढ़े तो पढ़े नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं बच्चे से नमाज बोला बोला बच्चे से नमाज हाँ। और नंबर दो किससे बात क्या रहा पागल पागल पागल जिसका दिमाग नहीं चलता हो ना हो अल्लाह ने कहा पढ़े नहीं पढ़े इससे दिमाग का ठिकाने ही नहीं मेरे दोस्तों आप लोग जब भजन नहीं पढ़ते हो सुबह में आठ बजे उठते हो तो सोचो मैं कहा जाऊँ इधर जाऊँ कि इधर बच्चा तो है नहीं अरे बच्चा है बता जाएगा तो दुनिया में समझता तो नहीं वो सफल जो ऊपर का परीक्षा कहता है पावली जाता है तो जब आगे मुझे निकलता होगा ना मेरी मोटरसाइकिल पर धार धार धार धार धार बम्पर बुला के जाता होगा ना नहीं तो सारी दुनिया देखेगी ओ मोदी बोल रहा था जवान देखो कितना अच्छा ऊपर से मोटा बेटा का तो पावला जाता है इसलिए अगर अटल पर बोलता है तो को छोड़ा होता है अरे बात समझ में नहीं आए इसे मेरे प्यारो बताओ भाई आप तो पढ़ोगे नमाज पढ़ोगे इन अल्लाह अल्लाह के बैठने सुनने को कबूल करना मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे नहीं मालूम था कि मोलधरा में इतने सारे लोग जमा हो जाएंगे मुझे तो बताने वाले ने कहा मौलाना छोटा सा गाँव है आ जाओ मैंने दावत कबूल की आ गया लेकिन माशाला आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता और ये दुआ देता हूँ कि अल्लाह आपके जान माल उम्र में बहुत बरकत अदा फरमाए अल्लाह आपको खूब तंदुरुस्ती अदा फरमाए मैं हमारे नौसानी के अमीन भाई और इस्माइल भाई इनको बिल्कुल नहीं भूल सकता इसलिए जब जब मेरा यहाँ हाईवे से गुजरना होता मैं तो रोजाना इस तरीके से गुजरता रहता हूँ हमारे अमीन भाई खाना पीना चाय वाई सब चलती रहती और अमीर भाई से मैं बहुत मोहब्बत इसलिए भी करता हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि आप भी दुआ करो इनका बेटा आपको मालूम होगा हमारे अमीर भाई नौसारी वाले इनका बेटा हाँ, जवान बेटा जवानी में कदम रखने वाला पुराने पाक करीब करने वाला यहाँ नौसारी हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हो गया वो बच्चा शहीद हो गया अकलों का बेटा एक ही बेटा था वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया मैं कभी कभी अमीर भाई को कहता हूँ फिक्र मत कर वो जन्नत में तुम्हारा इंतजार रखा होगा मैं वो जन्नत में तुम्हारा इंतजार करता होगा तो मेरे दोस्तों ये मैं आपका भी मेरे साथ माना उस्मान साहब आए और हमारे कठोर से हमारे यूसुफ मंसूरी साहब भी तशरीफ लाए तो उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता अल्लाह आप सबके जान माल उमर में बहुत बहुत बरकत अदा करना है तो खैर मेरे प्यारे दोस्तों अब आइंदा दूसरा लेसन नहीं मैं हमारे सुलेमान भाई पहुंचा कि नहीं पहुंचा जिसने मेरे को खाना खिलाया भाई पहुंचा सुलेमान भाई पहुंचे नहीं पहुंचे हाँ पहुंचा नहीं चला कोई क्या करेगा बीवी जाने से ही या जल्दी लोग तो भी कर मजबूरी है खैर हमारे सुलेमान भाई का भी बहुत बहुत शुक्र अदा करता है कि उन्होंने अपने घर की ओपनिंग बहुत पहले हुई लेकिन आज सही ओपनिंग करवाई दुआ के लिए बुलाया एक अल्लाह उनके घर को आबाद करे और साथ में कहो अल्लाह हम सबके घर को भी आबाद करे और हम अल्लाह के घर को आबाद करेंगे इंशाला ये अल्लाह का घर भरेगा इंशाला भरेगा इंशाला हम अल्लाह का घर को भरते जाएंगे अल्लाह हमारे घर को आबाद बनाता जाएगा इंशाला भाई तो मेहनत करेंगे इंशाला मैं बार बार अब नहीं कहूँगा नमाज के लिए बिल्कुल तैयार बोलो एक सौ एक परसेंट बहुत पर तैयार भाई सब तैयार है माशाल्लाह कोई नमाज छोड़ेगा नहीं ना नमाज कदा नहीं होगी नहीं इंशाल्लाह अच्छा, आप भी पढ़ो अपने घर में अम्मी बीवी बच्चे सबको सबको सबको नमाज के लिए अल्लाह की कसम अगर फजर में पूरा घर उठता होगा लाइट जल्दी होगी अल्लाह भी आसमान पर कहता होगा एक आसमान की जन्नत है एक जमीन की जन्नत है अल्लाह करे चैन सुकून अदा करेगा बहुत चैन सुकून अदा करेगा मैं करेंगे इन शाला और आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मौलाना हुसैन फसाफी बम्बई से तशरीफ लाए उनका भी और भी बहुत सारे लोग यहाँ के उलमा की हमारे मौलाना बैठे ये भाई बैठे तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है अल्लाह आपके जान मान उम्र में बरकत अदा फरमाए मैं एक कार्ड लेकर आया कार्ड इसको भी आज लगा जी मौलाना अब्दुल रशीद जो यहाँ के ना बहुत दराज मोहन दराज नावों को मैंने ताट दिया हूँ उसमें मेरे जवानों उसमें चार लाइन कितनी लाइन है आप लोग पढ़ोगे इंशाला ये कार्ड बाहर तकसीम होगा मैं बहुत मेहनत से लाया हूँ क्यों लाया हूँ मालूम है इसलिए कि मैं क्या चाहता हूँ मालूम काम कम नफा ज्यादा भाई ये तो हम लोगों का दस्तूर है मेहनत कम करेंगे और नफा आपको पास रखा हूँ मेरी उम्र तकरीबन होगी बीस साल उस वक्त की बात अभी तो इकतालीस पूरा डबल हो गया बीस साल जब मेरी उम्र थी ना तो मैं वहां गया था जौनपुर जौनपुर वहां खानका की हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब नवर अल्लाह मरकदों मेरे पहले शेख एक मतलब मैं उनके पास बैठा था उनके पास बैठा था महाराज ने मेरे को क्या सुन लिया मैं क्या बोला हजरत हजरत और मेरी तरफ बहुत प्यार से देखते हाँ क्या हुआ मैंने कहा हजरत हजरत एक दुआ करो ना अल्लाह मेहनत कम ले और पैसा ज्यादा ले और मैंने हजरत को बोला वो लोग काकल के ठिकाने भी नहीं थे मैंने कह दिया हजरत हजरत दुआ करो ना अल्लाह मेहनत कम ले और पैसा तो यू मेरी तरफ देखे उनसे देखने का देखा कहा अच्छी बात तो है मैं भी सोचा पैसे की बात करूंगा तो बुजुर्ग नाराज हो तो जाएंगे मैंने सीधा सीधा बोला कि अल्लाह मेहनत कम ले और पैसा तो मेरी तरफ देखे अच्छी दुआ मांगते हो मैंने कहा हजरत माफ करना मेरे को तो क्या माना ऐसी दुआ ने कहा ऐसी दुआ मत मांग ये कैसी दुआ कि मेहनत कम और पैसा अरे अल्लाह अल्लाह को कहे मेहनत नहीं दे और पैसा ज्यादा देते अल्लाह के पास मेहनत मांगने की जरूरत ही क्या है तो मेरे दोस्तों आज जो मैं कार्ड लाया हूँ वो कार्ड उसी की तर्जुमा नहीं करता है मैं आज जो कार्ड लाया हूँ वो क्या हुआ मालूम एक साहबिया सुना एक साहबिया और कहा अल्लाह के रसूल मैं तीन काम करना चाहता हूँ अल्लाह के रसूल ने कहा कौन से तीन काम करना चाहते हो कहा नंबर एक अल्लाह की तारीफ करना चाहता हूँ लेकिन ऐसी तारीफ ऐसी तारीफ किसी ने भी न किया दूसरा काम मैं आप पर जरूर पढ़ना चाहता हूँ ऐसा जरूर जो किसी ने भी न पढ़ा हो किसी ने भी अवतार नंबर तीन मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूँ ऐसी माफी जो किसी ने भी ना मांगी हो हमारे नबी ने चार जुमले बताए कितने जुमले बताए हमारे नबी ने चार जुमले बताए और कहा जा मेरे पैदा करने वाले की कसम ये पढ़ता है अल्लाह की वो करेगा इसकी तारीफ कोई नहीं करेगा मुझ पर वो जरूर मरेगा जो कोई नहीं पड़ेगा और अल्लाह से ऐसी माफी मांगेगा जो कोई नहीं मांगेगा और पढ़ने पूजा मुझे उसी वक्त माफ कर देगा तो वो वाले हमारे मौला अब्दुल रशीद का को कार तकसीम करके ले लोगे इंशाला लेकिन धक्का दुखी मत करना सबको मिले न मिले तो जेरो करा देना लेकिन धक्का दुखी से धक्का दुखी में वो कार भूल जाता है कभी उसको खींचते हैं तो फट जाता है उसमें अल्लाह का नाम है रसूल का नाम है एहतराम करोगे इंशाला चलो मेरा काम पूरा हो गया बताओ कोई काम बाकी है दुआ करें जिक्र करें सभा पढ़े फिर निचोड़ो निचोड़ो हाँ निचोड़ो जितना निचोड़ में नीनो आपके सामने निचोड़ो ये कोई नहीं पूछता कि मौना तो बीमार था अभी तक अच्छा हुआ कि नहीं हुआ चलो मैं बिहार के सभा में छोटा सी सूरत पढ़े ना मैं पढ़ू ना और उसके बाद सब जिक्र करेंगे इंशाला जिक्र दो मिनट दो मिनट जिक्र करेंगे इंशाला और फिर दुआ करेंगे इंशाला करेंगे इंशाला और मुलाकात मुलाकात मेरे दोस्तों मैं अभी से सलाम कर देता हूँ आप मेरे सलाम का जवाब दे दो मुलाकात की कोई तकलीफ नहीं उठाएंगे कि करो मुलाकात चलो ठीक है मुलाकात लेकिन मुलाकात में कोई धक्का नहीं है एक तरफ से आना इधर से आना और इधर से करोगे जितना करोगे इंशाला इधर से आओ आओगा उधर से जाओ और मुलाकात सही तरीके से करो जो अलग अलग गलत तरीके से सीधा सीधा सलाम होने को मैं कहूँगा आपने कहा सलाम वाले को हमारे अनुसार अब कुछ जमाने को देखता हूँ यूँ हाथ मिला यूँ कट यूँ देखा हो ना आपने कि वहां से सीओ मैंने कहा फोन का डब्बा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 वही है अल्लाह मोहम्मद आज जुमा की रात है बहुत दिल लगा कर अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह हम सबके मांगने को कबूल फरमाए अल्लाह मोहम्मद आफिक रसूल का रसूल والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا والإحسان بنا ولمشاركنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خلل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللہ ہمارے گناہ अल्लाह बहुत गुनाह किए माना बहुत गुनाह किए माना लंबा जमाना तो गुजर गया रात के अंधेरे में तुझे ना दिन के उजाले में तुझे ना लेकिन अल्लाह अब तौबा करने की कोशिश कर रहे हैं तेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह हमें माफ कर दे अल्लाह हमें माफ कर ना हमने इतनी नाफरमानी की अगर इतनी इतना खुश हमने माँ के सामने किया होता माँ भी हमको घर से निकाल देती बाप भी हमको धक्के माँ के लेकिन अल्लाह तूने इतने गुना देखे अल्लाह तूने हमारे इतने गुना देखे लेकिन तूने कभी रात को भूखा नहीं सुना कभी भी प्यासा नहीं कर पाया कभी तूने मदद से कपड़े नहीं छीने अल्लाह हम गुना करते गए मगर तू खिलाता हमको जब गर्मी लगी तूने ठंडा ठंडा शरबत पिलाया हमको जरूरत पड़ी तूने गरम गरम चाय पिलाई तूने शरबत पिलाने से पहले और चाय पिलाने से पहले कभी ये नहीं पूछा कि मेरा बंदा तू मुझे धोखा क्यों देता है मेरा बंदा तू गुना क्यों करता है बहुत गुना है के लेकर पाँव के नाकों तक हमारे मदद का टुकड़ा टुकड़ा गुनेगार में लौटा लेकिन अल्लाह तो करीम मौका करीम है तो रहीम मौका रहीम है तो रहमान और वहाब और सत्तार और तवार है अल्लाह तो हमको माफ कर दे और अल्लाह आज जुम्मन भी आते हैं हज का महीना है जुम्मन की ये मजबे में हाफिज कुरान बैठे हैं ये मजबे में तकरीदारी वाले बूढ़े बैठे हैं ये मजबे में रात के रोने वाले बैठे हैं अल्लाह इसलिए को बादशाह बनाकर तुमको माफ कर अल्लाह अगर तुम्हें माफ कर लेकिन खजाने में कुछ कमी थी तो कोई नहीं पूछे इतने बड़े पापी को क्यों बात किया था तुम तो पापी है मौला मुझे नहीं है मौला लेकिन अल्लाह तुझे कौन पूछने वाला अल्लाह को अगर माफ भी कर देगा फिर पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा कथा माफ कर दे माला अगर तू मंदिर के कथा दे दे देगा तेरे कथा से मैं कोई कभी भी तो नहीं आया माला अल्लाह अल्लाह ने माफ कर दे माला हम तेरे सामने गरीब है मौला हम तेरे सामने फकीर है मौला अल्लाह हमें माफ कर दे माला अल्लाह हमको भी माफ कर दे हमारे माँ बाप हमारे बाप को भी माफ कर दे अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज है तो कुछ हमारा हमने तुझे घबरा दी अपने विजय तो मखलूक भी हमसे नाराज अल्लाह पूरा हो गया अल्लाह पूरा हो गया जिनके माँ बाप जिंदा है अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अदा फरमा उनको तंदुरुस्ती अदा फरमा उनको सेहत अदा फरमा उनको शिफा अदा फरमा उनकी उम्र में दराजी अदा फरमा अल्लाह आज जुमा की यहाँ बहुत सारे बैठे हैं अल्लाह चुपा की रात यहाँ बहुत सारे बैठे इसमें कुछ ऐसे भी बैठे जिनकी माँ कबर में चली गई जिनके अब्बा कबर में चले गए अल्लाह उस पर क्या गुजरती होगी जिसकी माँ चली गई जिसके अब्बा चले गए अल्लाह माँ याद आती हो अब्बा याद आती हो कौन बोलेगा माँ को कौन बोलेगा अपने मरहूम माँ को कौन बोलेगा अल्लाह वो माँ थी तो घर में रामत रामत वो बाप था जन्नत का दरवाजा था वो एक बार गड्ढे पर हाथ रखता था तो इतना सुकून मिलता था अच्छा, वो बाप एक बार सिर्फ गड्ढे पर हाथ रख देता अरे मुस्कुरा देता था तो हमें बहुत अच्छा लगता था वो माँ वो माँ जिसने अनुमान हमारे हाथ से रखा करती थी वो माँ माँ थी जो रात को हमें ठंडी लगती थी तो चादर उड़ाया करती थी हम बीमार होते थे तो हमें उठा उठा के दवा पिलाती थी अरे अल्लाह वो माँ माँ थी जो गलती हम करते थे हमारे अब्बा उन्हीं को रखते थे हमारी माँ बाप की गालियाँ सुनती थी अपने जोर की गाली सुनती थी लेकिन कभी हमको थप्पड़ नहीं मारती वो हमको तो गले लगा लेती थी अल्लाह अम्मा अब्बा कबर में चले गए आज जुमा की रात है अल्लाह उनकी कबर को नूर से भर दे अल्लाह उनकी कबर को रहमतों से भर दे अल्लाह उनकी कबर को जन्नत का बाग बना दे अल्लाह उनकी कबर में नेमत से लुटा दे अल्लाह ये जितने तेरे बल सामने बैठे मेरे भाई बैठे अल्लाह सब ने नमाज पढ़ने का इरादा किया अल्लाह मुझे दिया था मुझे कुछ नहीं आता मेरे अंदर ये ताकत ही नहीं है मैं कुछ तेरे हुक्म के बगैर बोलो माना लेकिन अल्लाह जो कुछ कहा है मैंने और इन्होंने नमाज का इरादा किया है अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे वाला अल्लाह जी पूरे गाँव को नमाजी बना दे वाला जवान को नमाजी बना दे वाला एक एक जवान को नमाजी बना दे वाला चुन चुन के नमाजी बना दे वाला अल्लाह अल्लाह बहुत दिल दुखता है वाला कोई नमाज नहीं पढ़ता वजह की नमाज नहीं पढ़ता तूने अच्छा लूला लगना चेहरा नहीं बनाया काय को नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह सबको नमाजी बना दे वाला पूरे गाँव को नमाजी बना दे वाला पूरी उम्मत को नमाजी बना दे वाला अल्लाह जो बीमार है उनको पापा फरमाए जो कर्जे में डूबे होंगे कर्जे अदा करवा दे जो बे औलाद है उनका औलाद अदा फरमाए हमारे प्यारे नबी ने जो खैर मांगा वो सब अदा फरमा दे हमारे नबी ने जितने शुरू से पना मांगी उसे हम सबकी हिफाजत फरमा दे प्यारे नबी मोहम्मद के सदस्य को फैल हम सब दुआ को कबूल फरमा दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم